<coughs> दर्शन दूसरा पाद तेईसवां सूत्र चल रहा था अंग था अदर्शन के विषय में ये अदर्शन क्या है जो हमारे संयोग का कारण है बंधन का कारण है आदर्शन वो क्या है इस पे बात चलेगी इसमें आठ पक्ष रखे गए हैं पहला किम किम गुणानाम गुणानाम अधिकार अधिकार क्या गुणों का अधिकार ही आदर्शन है एक व्यक्ति का पक्ष है कि सत्व रज और तम ये तीन गुण है सत्व रज और तम ये जो तीन गुण है इनका अधिकार जो ऊपर दबाव रहता है शत्रुरजतम का संसार की ओर खाओ पियो भोगो पैसे कमाओ संसार के सुख भोगो दोनों का अधिकार है क्या इसी का नाम आदर्शन है एक पक्ष दूसरा आहोषित आहोस्वित् दृशिरूपस्य दृशिरूपस्य स्वामिनो स्वामिनो दर्शितविषयस्य दर्शितविषयस्य प्रधानचित्तस्य प्रधानचित्तस्य अनुत्पादः अनुत्पादः स्वस्मिन् स्वस्मिन् दृश्ये दृश्ये विद्यमाने विद्यमाने दर्शन अभाव दर्शन अभाव अहोस्वित अथवा अथवा अदर्शन का ये स्वरूप माना जाए कि दृषि रूप से स्वामी जो दृष्टा रूप स्वामी है जीवात्मा वो दृष्टा है भोगता है जगत का उस स्वामी जीवात्मा का दर्शित विषय से प्रधान चित्त अनुत्पादक दर्शित विषय विशेषण है चित्त का ऐसा चित्त जो विषयों का दर्शन कराता है विषयों का ज्ञान कराता है भोग कराता है और वो जो चित्त है उसका विशेषण यहां रखा प्रधान चित्त प्रधान चित्त का मतलब चित्त का वो स्तर जो हमें वैराग्य और मोक्ष की ओर ले जाएगा वो प्रधान चित्त ठीक है मुख्य चित्त का तात्पर्य यही है कि चित्त की एक ऐसी अवस्था जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाएगी वो बढ़िया चीज है बढ़िया स्थिति है तो उस चित्त का अनुत्पादा वो उत्पन्न नहीं हो पा रहा अर्थात चित्त में वो क्वालिटी नहीं आ पा रही कि हमको मोक्ष की ओर ले जाए वो स्तर नहीं बन पा रहा इसी को आगे खोला स्वस्मिन दृश्य विद्यमान दर्शन अभाव अपना भोग्य जगत उपस्थित होने पर वो हमें तत्व ज्ञान उत्पन्न कर ही नहीं पा रहा कि भाई चलो मोक्ष में चलना है यहां तो संसार में दुख है ये स्थिति नहीं आ पा रही क्या इसका नाम आदर्शन है ये दूसरा पक्ष हुआ तीसरा किम अर्थवत्ता किम अर्थवत्ता गुणाना गुणाना तीसरा पक्ष ये है कि क्या आदर्शन इसको माना जाए कि गुणों में अर्थवत्ता है अर्थ का मतलब प्रयोजन अर्थवत्ता मतलब प्रयोजन सिद्ध करने की क्षमता सत्वरज तम में ये क्षमता है कि वो हमें पिछले कर्मों का फल भी भुगवा सकते हैं और आगे मोक्ष भी दिला सकते हैं ये दोनों क्षमताएं हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्य ये जगत दोनों काम करा सकता है तो क्या सत्वरजतम जो गुण है इनमें प्रयोजन सिद्धि का जो सामर्थ्य है क्या इसी सामर्थ्य का नाम आदर्शन है ऐसा ये तीसरा पक्ष अथ अविद्या अथ अविद्या स्वचित्तेन स्वचित्तेन सह सह निरुद्धा निरुद्धा स्वचित्तस्य स्वचित्तस्य उत्पत्ति बीजम उत्पत्ति बीजम चौथा पक्ष है कि दर्शन क्या इसका नाम रखा जाए कि जो अविद्या है मिथ्या ज्ञान मिथ्या ज्ञान भ्रांति अविद्या क्या स्वचित्तेन सह निरुद्धा अपने चित्त के अंदर रहती हुई निरुद्ध माने रुकी हुई विद्यमान चित्त में स्थापित स्थित जो अविद्या है स्वचित्त से उत्पत्ति बीजम जो कि अपने चित्त की उत्पत्ति का कारण है अर्थात हर जन्म में ये चित्त को बनाए रखती है और नए नए शरीरों को उत्पन्न करती रहती है जो अविद्या हमारे मन में है ये बार बार जन्म दिलाती रहती है क्या इसका नाम अदर्शन है ये चौथा पक्ष है ठीक है विद्या अपने चित्त में रहती हुई बार बार अगले अगले जन्म को उत्पन्न करती रहती है मिथ्या ज्ञान क्या ये है अदर्शन तो इन आठ पक्षों में जो सही पक्ष है वो ये चौथे वाला है अविद्या ही मिथ्या ज्ञान ही बंधन का कारण है सांख्य में भी बंधो विपर्यात बंधन जो है वो विपर्य से मिथ्या ज्ञान से होता है ऐसा सांख्य में भी बताया गया ये सही पक्ष यही है चौथे वाला यही अदर्शन अर्थात अविद्या बार बार जन्म को पैदा करती है और जब तत्व ज्ञान होता है वो इस अविद्या को मिथ्या ज्ञान को नष्ट करता है जब इसको नष्ट कर देता है तो ये अगला जन्म उत्पन्न नहीं कर पाती और मोक्ष हो जाता है जो ऊपर बताया था तत्व ज्ञान से मिथ्या ज्ञान का नाश होता है यही है वो मिथ्या ज्ञान अदर्शन फिर आगे पांचवा पक्ष बताते हैं ऐसे अलग अलग लोगों के विचार हैं हम्म। एक और विचार आता है सामने किम किम स्थिति संस्कार स्थिति संस्कार क्षय क्षय गति संस्कार गति संस्कार अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्ति क्या अविद्या क्या आदर्शन इसका नाम माना जाए कि स्थिति संस्कार के समाप्त हो जाने पर गति संस्कार की अभिव्यक्ति हो जाना तो स्थिति संस्कार का मतलब सत्वरतम जो प्रकृति है वो अवस्था में थी प्रलय अवस्था में तो स्थिर थी उसमें हलचल नहीं थी कोई गति नहीं थी कोई जगत बना हुआ नहीं था सब चुपचाप परमाणु सत्वरतम पड़े हुए थे चुपचाप यह है स्थिति संस्कार चुपचाप शांति से पड़े रहना तो इस स्थिति का क्षय हो गया प्रलय समाप्त हो गई और गति संस्कार अभिव्यक्ति और गति संस्कार शुरू हो गया हलचल हो गई सृष्टि बनने लगी और इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया तो क्या कह रहे हैं कि प्रलय हट गई और सृष्टि बन गई क्या इसी का नाम आदर्शन है ये पक्ष है लोगों का अपना पांचवा पक्ष है इस विषय में कुछ वचन उद्धृत करते हैं किसी विद्वान का यत्र इदम उक्तम यत्र इदम उक्तम प्रधानम प्रधानम स्थित्या एव स्थित्या एव वर्तमानम वर्तमानम विकार विकार अकरणात् अकरणात् अप्रधानम स्यात् अप्रधानम स्यात् तथा तथा गत्या एव गत्या एव वर्तमानम वर्तमानम विकार विकार नित्यत्वात् नित्यत्वा अप्रधानम स्यात् अप्रधानम स्यात् तो यत्र इदम उत्तम जिस विषय में ऐसा किसी ने कहा है किसी आचार्य ने कहा है प्रधानम जो प्रकृति है प्रधान नाम मूल प्रकृति का है सत्वरजतम का उसका एक नाम है प्रधान प्रधान है मूल प्रकृति स्थित्या एवं वर्तमानम जब अपनी स्थिति रूप में रहती है प्रलय अवस्था में स्थिर है वो कोई गति नहीं कोई हलचल नहीं है चुपचाप पड़ी है जब इस रूप में रहती है प्रलय अवस्था में तब विकार अकरणार्थ तब वो विकारों को उत्पन्न नहीं कर रही सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे ये सब प्रकृति के विकार उसी से बने तो जब प्रलय अवस्था होती है और कोई विकार उत्पन्न नहीं होता जगत नहीं बनता इस कारण से वो अप्रधानम से आत तब वो प्रधान नहीं कहलाएगी क्योंकि वो प्रधान किसको कहते हैं जो अपने कार्यों को धारण करे प्रकर्षण धारयती प्रधान अच्छी तरह से जब अपने कार्य द्रव्यों को धारण करे तब प्रधान कहलाएगी तो प्रलय अवस्था में तो कोई चीज को बनाया नहीं तो उसने धारण नहीं किया अपने कार्य द्रव्यों को इसलिए वो प्रधान नहीं कहलाएगी और फिर गत्या एवं वर्तमान और जब गति रूप में वर्तमान है सृष्टि चल रही है उस समय विकार अनित्यत्वात उस समय विकार उसके अनित्य हैं जो सूर्य पृथ्वी आदि उत्पन्न हुए जगत के पदार्थ खाना पीना भोजन वस्त्र मकान आदि जो भी कार्य द्रव्य उत्पन्न हुए प्रकृति से वो नित्य नहीं है एक दिन वो टूट जाएंगे नष्ट हो जाएंगे तो क्योंकि वो नित्य नहीं है जब उनका विनाश होगा तब प्रकृति फिर इनको धारण नहीं कर पाएगी ये खत्म हो जाएंगे और फिर प्रलय आ जाएगी वापस इसलिए तब विकारों को सदा धारण न कर पाने की वजह से तब इसको फिर अप्रधान कहेंगे तो प्रकृति को अप्रधान के नाम से इन्होंने घोषित किया कि सृष्टि हो तो सृष्टि होने के बाद जब प्रलय होगी तब ये अप्रधान हो जाएगी अथवा सृष्टि बनी नहीं तब भी अप्रधान इस तरह से उभय बोलिए यहाँ पे विकारा हाँ, आ चाहिए विकार अकारणार्थ विकार विकारा है ना नहीं विकार नित्यत्व अंत में विकार विकार नित्यत्व नित्यत्वाद लिखा है हाँ तो अनित्यत्वाद होना चाहिए विकार नित्य तो होता है जो विकार द्रव्य उत्पन्न हुए सृष्टि के पदार्थ ये तो अनित्य है तो यहाँ अ होना चाहिए अगर पाठ में गड़बड़ है तो ठीक करिए विकार अनित्यत्वाद अप्रधान सर तब ये अप्रधान कहलाएगी क्योंकि विकार नित्य है नहीं विकार जब नित्य नहीं तो सदा उनको धारण नहीं कर पाएगी और जब सदा धारण नहीं किया उसने विकार नष्ट हो गए तो ये अप्रधान हो गई इस तरह से वे अप्रधान कहलाएगी इसको ऐसा भी पढ़ सकते क्या स्वामी जी गत्य गत्या आपने बोला संधि करके हाँ जी हाँ जी तो वो सीधा है तो गत्या हाँ ऐसा बोल सकते बोल सकते मैंने सुविधा के लिए तोड़ दी संधि हाँ नहीं अगर हमने सीधा बोला तो भी चलेगा हाँ चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा मैं जानबूझ के शब्दों को तोड़ देता हूँ हाँ, ताकि अच्छा उच्चारण में आसानी रहे हाँ आपको पता भी चले कि क्या शब्द कहाँ तोड़ना संधि तोड़ के थोड़ा सा उच्चारण की सुविधा हो जाए और थोड़े छोटे शब्द होने से उच्चारण सरल हो जाता है नहीं तो लंबे लंबे शब्द बोल ही नहीं पाएंगे आप बोल ही नहीं पाएंगे इसलिए मैं जान के छोटे कर देता हूँ नहीं कभी हमारी संधि गलत हो गई और सीधा जैसा है वैसा बोले तो चलेगा हाँ चलेगा चलेगा बिल्कुल चलेगा तो आगे बढ़ेंगे हाँ जी उभयथा च अस्य उभयथा च अस्य प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रधान व्यवहारम प्रधान व्यवहारम लभते लभते न अन्यथा तो कहते हैं उभयथा था अस्य दोनों ही प्रकार से इसकी प्रवृत्ति प्रधान के व्यवहार को प्राप्त होती है तो ये दोनों प्रकार से प्रवृत्ति करे प्रकृति तब ये प्रधान व्यवहार को प्राप्त होती है अन्यथा नहीं हो सकती हुआ नहीं हुआ उभयथा का मतलब नहीं, नहीं हुआ ना प्रधान सिद्ध किए हाँ पर ये ऐसा कहना चाहते हैं कि चाहे सृष्टि हो चाहे प्रलय हो हम्म। दोनों समय इसका प्रधान नाम तब होना चाहिए जब दोनों समय ये अपने कार्यों को धारण करे कार्यों को धारण करने से ही तो प्रधान नाम बनेगा ना अब कार्य जगत जब बन चुका सृष्टि काल है सृष्टि अवस्था है तब तो ये धारण कर रही है अपने कार्य द्रव्यों को प्रकृति धारण कर रही है जैसे ईट पत्थर ने मकान को धारण कर रखा है मकान तभी तक टिका है जब तक ईट पत्थर है उसमें ईट पत्थर निकाल लिए मकान में से तो फिर मकान क्या बचेगा तो जब मकान बना हुआ है तब तो ईट पत्थर ने मकान को धारण कर रखा है और जब टूट फूट के मकान खत्म हो गया तब तो मकान को इसने धारण नहीं किया हुआ तो एक स्थिति में तो ईट पत्थर मकान को धारण कर रहा है जब मकान बना हुआ है जब मकान टूट गया तब ये उसको धारण नहीं कर रहा तो एक में कर रहा है एक में नहीं कर रहा इसलिए इसको प्रधान नाम न देंगे तो ये कहना चाहते हैं कि सृष्टि काल में तो प्रकृति जगत को धारण कर रही है पर प्रलय काल में धारण नहीं कर रही दोनों समय में करना चाहिए तब इसका नाम प्रधान माना जाए और ये दोनों काल में धारण नहीं कर रही इसलिए इसको प्रधान नाम नहीं कहना चाहिए या प्रधान नाम इसका सिद्ध नहीं होता ऐसा एक व्यक्ति ने अपना <coughs> बस उसका अपना विचार है कारणांतरेशु अपि कारणांतरेशु अपि कल्पितेशु कल्पितेशु एषः एषः समानः समानः चर्चा चर्चा तो कहते हैं अभी जो मूल कारण हम प्रकृति को मानते हैं जगत का सत्य रजस तमस इसको हम मूल कारण मानते हैं और इसी से सारा जगत उत्पन्न हुआ तो जब हमने इसको मूल कारण मान लिया जगत का तो ये दोनों स्थितियों में प्रधान व्यवहार को सिद्ध नहीं कर पा रही दोनों स्थितियों में सृष्टि बनी हो अथवा प्रलय हो दोनों में ये प्रधान नाम से सिद्ध नहीं हो पा रही तो ऐसे ही चाहे इस मूल प्रकृति को मानो जगत का मूल कारण चाहे किसी और पदार्थ को मानो इसकी जगह कोई दूसरा नाम रख लो कोई और वस्तु मान लो उस पर भी समान ही चर्चा है समान बात उस पर भी आएगी वो भी दोनों समय जगत के पदार्थों को धारण नहीं कर पाएगी इसलिए कोई भी वस्तु प्रधान नाम से नहीं कहला पाएगी तो ऐसा मानना ये आदर्शन है अच्छा। ये एक व्यक्ति का मत है कैसे अजीब अजीब विचार है लोगों के जैसे आजकल का एक विचार है अनेकता में एकता कोई सिर पैर की बात है क्या अनेकता में एकता बेवकूफी की बात है फिर भी चल रहा ऐसे ऐसी संस्था की बहुत सी बातें होती हैं वो चलती रहती तो ये किसी का मत है एक व्यक्ति का विचार है जी इन पक्षों में यानी ये देखा जा रहा है कि दोष है वो किसी और के मतलब ये पक्ष हाँ क्या कहना चाहते हैं जो दोष है हाँ आदर्शन हाँ।, हाँ, हाँ ये स्वयं पर न मर के किसी और पर ये हाँ वो आदर्शन का स्वरूप ये मान रहे भाई क्या इस चीज का नाम आदर्शन है क्या इस चीज का नाम आदर्शन है क्या इस चीज का नाम आदर्शन है जो हमारे बंधन का कारण है ऐसे ऐसे तो जैसे लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है अब अपना उसका विचार है जरूरी नहीं कि वो ठीक हो उसका अपना विचार है उसकी बुद्धि ऐसी चलती तो ऐसे ऐसे लोगों की अलग अलग बुद्धि चलती है कोई किसी को अविद्या आदर्शन मान रहा है कोई किसी चीज को आदर्शन मान रहा है मानते रहो पर सबका विचार ठीक नहीं है रस्ते अलग अलग हैं मंजिल तो एक है <laughs> सब धोखेबाजी सब झूठ है पर चलता है लोग ऐसा मानते रहते हैं बोलते रहते हैं तो ये था पांचवा पक्ष छठा पक्ष दर्शन शक्ति एव दर्शन शक्ति एव अदर्शनम अदर्शनम इति एक इति एक अब देखिए एक और मत है कि दर्शन शक्ति ही अदर्शन है कुछ लोगों का ऐसा मत है जो दर्शन शक्ति है वही अदर्शन है मतलब बुद्धि जो है जो ज्ञान कराने वाली बुद्धि तत्व है उसी का नाम आदर्शन है उसका अपना विचार है प्रधान से प्रधान से आत्मख्यापनार्थ प्रवृत्ति प्रवृत्ति श्रुते श्रुते प्रधान जो प्रकृति है आत्मख्यापनाथ प्रवृत्ति उसकी प्रवृत्ति है कि वो अपना स्वरूप प्रकट करती है जब जगत बनता है तो प्रकृति अपने स्वरूप को प्रकट करती है देखो मैं केला अंगूर अनार सेब संतरा आदि आदि सब चीजें मैं बना सकती हूँ अच्छे अच्छे सूरज चांद तारे बड़ी बड़ी वो घाटियां पर्वत नदियां वृक्ष वनस्पति सुंदर सुंदर फूल सुगंधिदायक ये वो मैं सब बना सकती हूँ वो अपने स्वरूप को दिखाना चाहती है ये प्रकृति की प्रवृत्ति है इस तरह से ऐसी उसकी प्रवृत्ति है इति श्रुते ऐसा हम सुनते आते हैं लोगों से सर्वबोध्य सर्वबोध्य बोध समर्थ बोध समर्थ प्राक प्रवृत्ते प्राक प्रवृत्ते पुरुषो पुरुषो न पश्यति न पश्यति ये तो प्रकृति की प्रवृत्ति है कि वो अपना स्वरूप दिखाना चाहती है जब जगत बनेगा तब अपना स्वरूप दिखाएगी स्विट्जरलैंड कश्मीर की पहाड़ियां ये वो सब अपना अपना दमक आकर्षण दिखाएगी अपनी वो उसकी प्रवृत्ति है और जीवात्मा की बात करते हैं सर्वबोध्य बोध समर्था ये जीवात्मा है सभी सर्व सभी बोध्य जानने योग्य पदार्थ जो जगत के पदार्थ हैं इनको बोध समर्था जानने में समर्थ है आज देखिए इलेक्ट्रॉन से लेकर के और सूर्य तक बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक मनुष्यों ने बहुत कुछ जान लिया छोटी से छोटी वस्तु को एनर्जी को क्वार्क्स को इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स को एलिमेंट्स को सब जानते हैं और बड़े बड़े सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज सब जानते हैं तो मनुष्य इन सब चीजों को जानने में समर्थ है ऐसा जो पुरुष है जीवात्मा ये पुरुष प्राग प्रवृत्ति न पश्यती प्रवृत्ति का मतलब जब जगत उत्पन्न हुआ हम्म। उससे प्राग पहले जब प्रलय थी तो प्रलय अवस्था में ये कुछ नहीं देखता था यद्यपि वो देखने जानने में समर्थ है पर प्रलय की स्थिति में नहीं जान पा रहा था क्योंकि ये कुछ पदार्थ बने हुए भी नहीं था और उसके पास देखने के साधन भी नहीं थे बुद्धि मन इंद्रिया हाथ पांव आंखना कुछ कुछ भी नहीं था शरीर भी नहीं था तो इस समय वो प्रलय में चुपचाप पड़ा हुआ था बेहोश था तो ये उसकी स्थिति थी सर्व कार्य सर्व कार्य करण करण समर्थम समर्थम दृश्यम दृश्यम तदा तदा न दृश्यते न दृश्यते इति इति ये जो दृश्यम है जगत ये जगत सर्व कार्य करण समर्थम सभी कार्यों को करने में समर्थ है अर्थात जगत के जो पदार्थ हैं कार्य जगत के इन कार्य पदार्थों से हम सारे काम कर सकते हैं मकान बना लो रेल बना लो जहाज बना लो रॉकेट बना लो कंप्यूटर बना लो हर चीज को बना सकते हैं जो भी हमें आवश्यकता है जिन चीजों की उन सब चीजों को हम उन सब कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं तो जिस जगत से सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं सभी कार्यों की सिद्धि में जो समर्थ है जगत वो जगत तदा प्रलय अवस्था में न दृश्य थे उस समय वो दिखता नहीं था क्योंकि उस समय बना हुआ नहीं था जब कुछ बना ही नहीं तो दिखेगा क्या तो प्रलय की स्थिति में जगत तो बना हुआ नहीं था इसलिए दिखता नहीं था जीवात्मा के पास साधन नहीं थे शरीर मन बुद्धि इंद्रिया कुछ साधन नहीं थे वो देखने में असमर्थ था तो ऐसी स्थिति में जीवात्मा का जो तत्व ज्ञान है वो उत्पन्न नहीं हो पा रहा था तो ये शुरू में जो कहा ना दर्शन शक्ति वो अदर्शन वो जो उसका तत्व ज्ञान है कि जगत कैसा है ये ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पा रहा था तो कुछ लोग कहते हैं यही अदर्शन है दर्शनम है वो अदर्शन वो तो तत्व ज्ञान जो है एक मिनट यहां हमने क्या बुद्धि किया था बुद्धि हाँ बुद्धि तो जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाली बुद्धि है वो बुद्धि ही अदर्शन है ऐसा कुछ लोगों का विचार था क्योंकि उस समय प्रलयावस्था में बुद्धि बनी हुई नहीं थी हम्म। तो बुद्धि आदि साधन न होने से जीवात्मा देख नहीं पा रहा और जगत बना नहीं हुआ था तो वो दिख भी नहीं पा रहा था तो क्या इसका नाम आदर्शन है इस स्थिति का नाम ये एक पक्ष है तो प्रलय काल प्रलय काल की बात है जी फिर सातवीं बात उभय अपि उभय अपि अदर्शनम अदर्शनम धर्म धर्म इति एक कुछ लोगों का विचार ऐसा है कि ये जो आदर्शन है ये दोनों का धर्म है दोनों का मिला जुला करके दोनों का जो धर्म है वो आदर्शन है क्या है तत्र इदम तत्र इदम दृश्यस्य दृश्यस्य स्वात्मभूतमपि स्वात्मभूतमपि पुरुष प्रत्यय पुरुष प्रत्यय अपेक्षम अपेक्षम दर्शनम दर्शनम दृश्य धर्म दृश्य धर्म भवति भवति तत्रिदम इस विषय में ऐसा समझना चाहिए इसकी व्याख्या में खोलते हैं बात को दृश्य से दृश्य का दृश्य का अर्थात जगत का स्वात्मभूतम अपि दर्शन अपना जो स्वरूप है जगत का जो अपना स्वरूप है उसका दिखना पुरुष प्रत्यय अपेक्षा पुरुष के ज्ञान की अपेक्षा से दिखना जगत किसको दिखेगा पुरुष कब दिखेगा जब पुरुष उसको देखेगा तो जगत का जो ज्ञान होगा वो तब होगा जब पुरुष की अपेक्षा होगी यानी पुरुष इसको देखेगा इसको जानेगा भोगेगा इसका स्वरूप जानने की कोशिश करेगा तब जगत का स्वरूप दिखेगा जाना जाएगा तो ये पुरुष प्रत्यय की अपेक्षा से ज्ञान हो, पा, हो पाएगा मतलब जीवात्मा इसको देखेगा तब ज्ञान हो पाएगा दृश्य धर्मत्व भवती तब ये दृश्य के रूप में प्रकट होगा अर्थात सूर्य अपने आप को सूर्य के रूप में प्रस्तुत करेगा तभी तो करेगा जब जीवात्मा सूर्य को देखेगा यदि जीवात्मा सूर्य को देखेगा ही नहीं तो सूर्य अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाएगा किसको प्रस्तुत करेगा किसी ने देखा ही नहीं तो ऐसे ही फल सब्जी अनार केला अंगूर सेब संतरा जो भी चीजें हैं वो तभी अपना स्वरूप दिखा पाएंगे जब कोई इनको देखेगा तो जगत ने अपना स्वरूप प्रस्तुत किया जब पुरुष ने इसको देखा आगे पढ़िए तदा तथा तथा पुरुष पुरुषस्य अनात्म भूतम अनात्मभूतमपि दृश्य प्रत्यय दृश्य प्रत्यय अपेक्षम अपेक्षम पुरुष धर्म पुरुष धर्म अदर्शनम अदर्शनम अवभासते अवभासते एक बात तो ये हुई प्रकृति की कि वो उसको जब जीवात्मा देखे तब वो अपना स्वरूप दिखलाए अब दूसरी बात जब जीवात्मा जगत को देखे ठीक है तथा पुरुष से पुरुष का दृश्य प्रत्यय अपेक्षा दृश्य के ज्ञान की अपेक्षा से जब वो शरीर है ये शरीर जगत का भाग है और सारा जगत दृश्य है तो मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये सब दृश्य है जब जीवात्मा शरीर में आ जाता है तो वो शरीर को ही मैं समझता है लोग सभी लोग शरीर को ही मैं समझते हैं अपने शरीर को मैं समझते हैं दूसरे के शरीर को दूसरा व्यक्ति समझते हैं आम आदमी को शरीर अलग और आत्मा अलग नहीं दिखता वो तो जब मर जाता है तब दिखता है डेड बॉडी होती है तब दिखती है हाँ ये तो चला ही गया अब तो ये खाली शरीर बचा है तब दो अलग अलग चीजें दिखती हैं जीवित अवस्था में दो अलग नहीं दिखते अब उसको जो मैं पन का ज्ञान हो रहा है अपने स्वरूप का वो शरीर को जोड़ करके मैं का ज्ञान हो रहा है मैंने दृश्य प्रत्यय अपेक्षा दृश्य के ज्ञान सहित उसको अपना ज्ञान हो रहा है अगर शरीर उससे हटा दिया जाए तो उसको मैंपन का कुछ बोध नहीं हो पाएगा कि मैं कौन वो तो शरीर को ही मैं समझ रहा तो जीवात्मा को जो ज्ञान है वो प्रकृति के साथ जुड़ करके हो रहा है प्रकृति जो अपना स्वरूप दिखा रही है वो जीवात्मा देखे तब उसका ज्ञान हो तो दोनों का रोल हुआ इस ज्ञान होने में दोनों का रोल है प्रकृति का भी पुरुष का भी तो यहां ये कहना चाहते हैं पुरुष से अनात्मभूतम अपनी वो पुरुष का अपना स्वरूप नहीं है शरीर को जो मैं समझ रहा है व्यक्ति ये उसका अपना स्वरूप नहीं है तब भी शरीर के साथ जुड़कर वो शरीर वाले ज्ञान को मैं का ज्ञान समझ रहा है मैंपन को इस रूप में देख रहा है दृश्य प्रत्यय अपेक्षा पुरुष धर्मत्व अवभाषित वो पुरुष के रूप में उसको प्रतीत होता है कि वह शरीर ही मैं हूं कहीं धन संपत्ति को मैं समझता है या मेरी आत्मा का एक हिस्सा है धन संपत्ति पुत्र परिवार आदि आदि इन सब चीजों को वो अपनी आत्मा का हिस्सा मानता है आत्मा का स्वरूप मानता है तो इस प्रकार से दोनों चीजें अपना अपना रोल करती हैं और आदर्शनम इन दोनों का धर्म है सार क्या हुआ जगत का दिखना और जीवात्मा का जगत को देखना ये दोनों का अपना अपना रोल जोड़ दें तो इसका नाम आदर्शन है ये एक सातवां पक्ष अंतिम और आठवां पक्ष पढ़ेंगे दर्शन दर्शन ज्ञानम ज्ञानम एव एव अदर्शनम अदर्शनम इति केचित केचित अभिदधति अभिदधति तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो दर्शनम ज्ञानम एव अदर्शनम जो तत्व ज्ञान है वही अदर्शन हम्म। तत्व ज्ञान ही अदर्शन है मिथ्या ज्ञान है तत्व ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है कुछ लोगों का ऐसा पक्ष है तो इति एते इति एते शास्त्रगता शास्त्रगता विकल्पा विकल्पा इस प्रकार से अदर्शन के संबंध में भिन्न भिन्न शास्त्रों में विद्यमान ये विकल्प हैं तो यहाँ शास्त्र से अवैदिक शास्त्र लेना वैदिक और अवैदिक सभी शास्त्र ले लो ये वैदिक अवैदिक मान्यताएं हैं अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पुस्तकों में ये लोगों के अपने अपने विचार लिखे हैं इन्हीं में से एक पक्ष अपना वैदिक भी है जो चौथे नंबर पर बताया था वो भी शास्त्र है शास्त्र में कहा गया है और बाकी अन्य अन्य संप्रदाय वालों के शास्त्रों में कहे गए तत्र तत्र विकल्प बहुत्वम विकल्प बहुत्व एक एतत् सर्वपुरुषाणाम सर्वपुरुषाणाम गुणानाम गुणानाम संयोगे संयोगे साधारण साधारण विषय विषय तो अलग अलग मान्यताओं वाले लोगों का ये अपना अलग अलग विचार है आदर्शन को वो इस इस रूप में मानते हैं परंतु सभी विचार वाले लोगों का आठ प्रकार के विचार वाले लोगों का एक बात में सबका सहमति है एक बात में सबकी सहमति है क्या है वो गुणानाम संयोग साधारण विषय ये सब अविद्या आदर्शन जो है वो तभी होगा जब गुणों का शरीर आत्मा के साथ संयोग होगा आत्मा और शरीर का संयोग होगा इस स्थिति में ही आदर्शन होगा जो भी होगा जब आत्मा शरीर के साथ संयुक्त नहीं हुआ तो फिर आदर्शन नहीं होगा तो इस मामले में तो सभी एक मत हैं कि आत्मा शरीर के साथ जुड़ना चाहिए तब यह अविद्या का रूप बनता है तो ये अलग अलग विचार थे रख दिए सारे ठीक नहीं है केवल एक ही ठीक है चौथे नंबर पे जो बताया अविद्या मिथ्या ज्ञान ये हमारे चित्त में बैठी रहती है और बनी रहती है वर्षों तक हजारों लाखों करोड़ों जन्मों तक बनी रहती है और बार बार पुनर्जन्म को उत्पन्न करती रहती है ये जो मिथ्या ज्ञान अविद्या है इसी का नाम आदर्शन है और जब हमको तत्व ज्ञान हो जाता है यथार्थ रूप से समझ में आता है ईश्वर कैसा प्रकृति कैसी और जीवात्मा कैसा तीनों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो तब ये मिथ्या ज्ञान हट जाता है प्रकृति दुखदायक समझ में आ जाती है ईश्वर आनंद स्वरूप न्यायकारी समझ में आ जाता है और जीवात्मा का अपना स्वरूप ठीक समझ में आ जाता है मैं अणुमात्र हूं और ये खीर पूरी हलवा मेरे अंदर नहीं जाने वाला ये तो यहीं रह जाएगा संपत्ति सोना चांदी सब यहीं रह जाएगा तो क्यों इसके पीछे दौड़ लगाओ उसको अपना स्वरूप भी समझ में आ गया बस इसका नाम है तत्व ज्ञान जब इन तीन पदार्थों के बारे में ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है तब ये अविद्या नष्ट हो जाती है और हमारे पुनर्जन्म को उत्पन्न नहीं कर पाती और बस फिर उत्पन्न नहीं कर पाती तो मोक्ष हो जाता इस प्रकार से तत्व ज्ञान से अविद्या का नाश होता है अविद्या के नाश से मोक्ष होता है सच बात तो ये है पर मोटे तौर पे सीधा कह देते हैं कि तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा ऐसे इन है वो इनडायरेक्ट मोटे तौर पे कह देते हैं जैसे कार से पेट्रोल से कार चलती जबकि पेट्रोल से एनर्जी पैदा होती है पेट्रोल जलने से एनर्जी पैदा होती है और एनर्जी से कार चलती है सच बात तो ये है तो ये संयोग का स्वरूप हो गया इस सूत्र में अब इसका सूत्रकार सुनिए <clears throat> स्वस्वामी शक्तियों स्वशक्ति और स्वामी शक्ति स्वशक्ति जो शरीर मन बुद्धि इंद्रिया है भौतिक पदार्थ जो जीवात्मा के साथ जुड़े ये है स्वशक्ति और स्वामी शक्ति जीवात्मा इन दोनों के स्वशक्ति और स्वामी शक्ति दोनों के स्वरूप उपलब्धि हेतु दोनों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला कारण हेतु कारण स्वरूप दोनों का जो स्वरूप है अपना अपना उपलब्धि माने ज्ञान दोनों के स्वरूप का ज्ञान कराने वाला जो कारण है वो सहयोग है अर्थात आत्मा और शरीर जब आपस में कनेक्ट होंगे जुड़ेंगे तभी उसको ये समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर ये मन बुद्धि इंद्रिय है ये मुझसे अलग चीज है मुझे ईश्वर ने दिए साधन एक तो पिछला कर्म हल भोग लो इसलिए दिए और आगे नए अच्छे कर्म कर लो मोक्ष प्राप्त कर लो इसलिए दिए तो अपना भी स्वरूप और जगत का भी स्वरूप दोनों का स्वरूप जब समझ में आ जाए जिस कारण से उसका नाम है संयोग तो ये संयोग बड़ा विचित्र है आगे तत्व ज्ञान कराने का कारण भी है और ये दुख भोगवाने का कारण भी है इसी की वजह से दुख भोग रहे आत्मा और शरीर का संयोग हुआ तभी तो दुख भोग रहे हैं शरीर में आगे फंस गए अब इसकी वजह से दुख भोग रहे कोई बात नहीं पिछले कर्मफल की वजह से हम यहां घुस गए शरीर में फंस गए हैं अपना कर्मफल भोग रहे हैं अब इसी चीज का हमको लाभ उठाना शरीर में रहते हुए शरीर बुद्धि मन इंद्रियों रूपी साधनों से इससे ये लाभ उठाना है कि प्रकृति को भी जानो और खुद को भी जानो और फटाफट मोक्ष में जाओ छोड़ो इस जगत को बहुत जन्म हो ये हमारा पहला जन्म नहीं <laughs> पहला जन्म नहीं है पहले कितने जन्म ले चुके खूब खा लिया पी लिया देख लिया कुछ भी नहीं हुआ सब वहीं के वहीं कोई कोई हमें हमारी इच्छाएं शांत नहीं हुई उल्टा और भोगते जाते हैं उतनी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं तृप्ति तो होती है बस ये तत्व ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे मोक्ष में चले जाएंगे ये था संयोग का स्वरूप अब आगे प्रश्न उठता है अगले सूत्र में इसकी भूमिका बोलिए यस्तु यस्तु प्रत्यक चेतन से प्रत्यक चेतन से स्वबुद्धि संयोग स्वबुद्धि संयोग तो ये जो संयोग बतलाया अभी तेईसवें सूत्र में यस्तु जो तो प्रत्यक चेतन जो आंतरिक चेतन पदार्थ है शिव के अंदर रहने वाला आंतरिक चेतन पदार्थ है यानी जीवात्मा उस आत्मा का स्वबुद्धि संयोग अपनी बुद्धि के साथ जो उसका संयोग हुआ बुद्धि से केवल वही समझना है बुद्धि तो एक उदाहरण मात्र है बाकी सभी चीजें साथ साथ जोड़ लेंगे शरीर मन इंद्रिया आदि वो भी इसके साथ है जैसे पहले बताया था कि मुख्यमंत्री जी को बुलाया तो वो अकेले थोड़ी आएंगे पूरा काफिला आएगा साथ में तो बुद्धि का संयोग हुआ तो फिर सभी चीजों का साथ साथ होगा केवल अकेली बुद्धि का तो होता नहीं अर्थात बुद्धि और साथ साथ जितने भी मन इंद्रिया शरीर आदि पदार्थ हैं और भौतिक संपत्तियां हैं इन सबके साथ जो जीवात्मा का संयोग हुआ आत्मा जो शरीर आदि के साथ जुड़ा इस संयोग का आगे बताते हैं कारण क्या है सूत्र चौबीस बोलिए तस्य तस्य हेतुर हेतुर अविद्या अविद्या इसका हेतु अविद्या क्यों आए शरीर में अविद्या के कारण अभी भी आगे जन्म लेना चाहते हैं क्या कारण अविद्या जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक संयोग होता रहेगा तब तक बार बार जन्म मिलता रहेगा क्या विद्या है संसार में बहुत सुख है यही तो अविद्या है जब तक आपको सुख दिखेगा तब तक बार बार जन्म लेंगे धन कमाने में सुख है मकान बनाने में सुख है खाना पीना डांस करने में सुख है ये सारी अविद्या है अब यहां ये नहीं कहना चाहते कि खाने पीने में सुख नहीं है टोटल नहीं है सुख ऐसा नहीं कह रहे जीरो नहीं है है सुख दस परसेंट बीस परसेंट अस्सी परसेंट दुख है लोग इस अस्सी परसेंट दुख को नहीं देख रहे और वो बीस परसेंट सुख को सौ परसेंट सुख मान रहे वो तोलानी जी कह रहे थे ना कि शरीर में शरीर में हम आते हैं तो इससे सुख भी तो भोगते हैं मैंने कहा बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भोगते पर ये भूल जाते हैं कि इससे दुख कितना भोगते हैं इसी शरीर की वजह से दुख कितने भोगते हैं वो भूल जाते हैं बस ये जो भूल जाते हैं इसी का नाम अविद्या है बताना ये चाहते हैं जब तक ये अविद्या बनी रहेगी संसार में जो 20 प्रतिशत सुख मिलता है उसको तो हम याद रखेंगे और 80 प्रतिशत जो दुख मिलता है उसको हम भूल जाएंगे बस ये है अविद्या और जब तक ये बनी रहेगी तब तक हमारा बार बार जन्म होता रहेगा हम बार बार जन्म लेंगे ये सुख भोगने के लिए और फिर बहुत जन्मों तक ऐसे मार खाते रहेंगे दुख भी भोगते रहेंगे भोगते भोगते भोगते जब थक जाएंगे तंग आ जाएंगे तब हमको ज्ञान होगा कि यहाँ तो सुख थोड़ा ही मिलता है और दुख ज्यादा मिलता है तब ये कभी ज्ञान होगा तब उसका नाम तत्व ज्ञान है पर जब तक वो नहीं हुआ तब तक विद्या बनी रहेगी और हमको बार बार संयोग उत्पन्न करती रहेगी बार बार जन्म दिलाती रहेगी तो इस संयोग का कारण बहुत अच्छा बताया तस्य हेतु अविद्या इस संयोग का हेतु कारण अविद्या है ये हो गया सूत्रार्थ अब भाष्य को पढ़ते हैं विपर्य ज्ञानम विपर्य ज्ञानम विपर्य ज्ञान वासना विपर्य ज्ञान वासना इत्यर्थ इत्यर्थ ये जो अविद्या शब्द आया सूत्र में उसको खोल रहा है कि अविद्या का तात्पर्य क्या विपर्य ज्ञान वासना मिथ्या ज्ञान का संस्कार इत्यर्थ ये तात्पर्य है अविद्या का अर्थ विद्या का अभाव नहीं समझना ज्ञान का अभाव नहीं समझना जैसा पिछले आठ पक्षों में किसी ने कहा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा वही आदर्शन है वो कहता है ना तत्व ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ इसका नाम आदर्शन नहीं है आदर्शन अविद्या इसका नाम है कि जो मिथ्या ज्ञान का जो संस्कार है जो एग्जिस्टेंट है जो सत्तात्मक चीज है वो है अविद्या ज्ञान के अभाव का नाम अविद्या नहीं है ये यहां खास ध्यान देने की बात है क्योंकि जो अभाव है किसी चीज का वो अभाव कुछ नहीं कर सकता कुछ क्रिया उत्पन्न नहीं कर सकता अभाव किसी को बांध नहीं सकता किसी पशु को बांधना हो तो क्या अभावात्मक रस्सी से बांध सकते जो रस्सी है ही नहीं बांधेगी क्या बांधने वाली रस्सी कम से कम सत्तात्मक होनी चाहिए तभी तो बांध पाएगी वो उसमें बांधने की क्षमता होगी तो अभावात्मक रस्सी में तो बांधने की क्षमता ही नहीं है इसलिए ज्ञान के अभाव का नाम यहाँ पर अविद्या नहीं है वो तो बांध नहीं पाएगी जो मिथ्या ज्ञान है वो सत्तात्मक है वो बांध लेता है जैसे कोई आदमी जलेबी देखता है बाजार में गरम गरम देसी घी की जलेबियां बन रही हैं तो उसको मिथ्या ज्ञान हो जाता है कि ये बहुत बढ़िया है इसका सुख लेना चाहिए और वो मिथ्या ज्ञान उसको बांध लेता है वो वहीं रुक जाता है हाँ भैया जरा सौ ग्राम जलेबी देना <laughs> चलते कदम वहीं रुक जाते हैं उसके कदम को बांध लिया उसने तो सत्तात्मक ज्ञान जो मिथ्या ज्ञान है वही किसी को बांध सकता है इसलिए अविद्या का तात्पर्य ऐसा समझना चाहिए मिथ्या ज्ञान का संस्कार यह अभिप्राय आगे पढ़िए विपर्य ज्ञान विपर्य ज्ञान वासना वासना वासिता वासिता च च न न कार्य निष्ठा पुरुष ख्यातिम पुरुष ख्यातिम बुद्धि बुद्धि प्राप्त होती ये जो निष्ठम लिखा है ना निष्ठाम होना चाहिए निष्ठाम ये ख्याति का विशेषण है इसलिए वो स्त्रीलिंग बनेगा तो कहते हैं विपर्य ज्ञान वासना वासिता बुद्धि जो हमारी बुद्धि है जो भी हमारा अंतकरण है वो यदि मिथ्या ज्ञान के संस्कारों से युक्त है चित्त आदि में बहुत सारे मिथ्या ज्ञान के संस्कार भरे पड़े अगर ऐसी बात है तो कार्य निष्ठा कार्य की समाप्ति को पुरुष ख्याति में पुरुष के ज्ञान को मतलब जीवात्मा का ज्ञान वो हो जाए उनको जीवात्मा का भी अलग ज्ञान हो गया प्रकृति का अलग ज्ञान हो गया दोनों का स्वरूप पृथक पृथक समझ में आ गया यदि हमने इतना काम कर लिया तो हमारा संसार में आने का काम पूरा हो गया ये कार्य निष्ठा निष्ठा माने समाप्त तो कार्य की समाप्ति को बुद्धि न प्राप्त होती वो प्राप्त नहीं करती कौन सी बुद्धि जिसमें अविद्या भरी पड़ी जिस बुद्धि में अविद्या भरी पड़ी है जिस चित्त में अविद्या भरी पड़ी है वो चित्त हमें इस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाएगा कि हमको जीवात्मा का स्वरूप अलग समझ में आ जाए और जगत का स्वरूप अलग समझ में आ जाए तो उसका काम पूरा नहीं हुआ फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा फिर ये काम कंप्लीट करना है कि जीवात्मा को अलग समझो और जगत को अलग समझो अगले जन्म में भी खा पी लिया डांस कर लिया फिर भी बात नहीं बनी अविद्या फिर भी बैठी है तो वो और अगला जन्म लो और अगला जन्म लो और अगला जन्म लो जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक जन्म लेते रहना पड़ेगा और काम पूरा कब होगा जब ये मिथ्या ज्ञान हट जाए पुरुष का स्वरूप अलग समझ में आ जाए प्रकृति का अलग समझ में आ जाए बस ये काम पूरा हो जाएगा तो जब तक ये काम पूरा नहीं हुआ और चित्त में अविद्या खूब भरी पड़ी है तब तक वो बुद्धि पुरुष ख्यातिम कार्य निष्ठान न प्राप्त होती वो पुरुष के स्वरूप को अलग से ज्ञान नहीं करा पाएगी कार्य की समाप्ति नहीं करा पाएगी फिर क्या होगा साधिकारा साधिकारा पुनरावर्त पुनरावर्तते बार बार जन्म में हमको बांधे रखेगी वो अधिकार सहित है भोगों का दबाव उसके ऊपर है खाओ पियो पैसे कमाओ संपत्ति जमा करो सोना चांदी खरीदो मकान खरीदो इतनी इन्वेस्टमेंट कर दो इतना यहाँ कर दो इतना वहां कर दो तो उसी में हम उलझे रहेंगे और बार बार हमारा जन्म चालू रहेगा ये परिणाम आएगा सातु सातु पुरुष ख्याति पुरुष ख्याति पर्यवसाना पर्यवसाना कार्य निष्ठाम कार्य निष्ठाम प्राप्त प्राप्नोति चरिताधिकारा चरिताधिकारा निवृत्त अदर्शना निवृत्त अदर्शना बंध कारण बंध कारण अभाव अभाव न न पुनरावर्तते पुनरावर्तते तो वो बुद्धि सा वह बुद्धि तो कार्य निष्ठा प्राप्त होती कार्य की समाप्ति के स्तर को पहुंच जाएगी क्या कार्य की समाप्ति पुरुष ख्याति पर्यवसान पुरुष का ज्ञान पूरा हो गया कंप्लीट हो गया यह है कार्य की समाप्ति मतलब जीवात्मा का स्वरूप पूरा समझ में आ गया और जगत का स्वरूप पूरा समझ में आ गया दोनों का स्वरूप अलग अलग पता चलेगा बस ये कार्य समाप्ति है जब तक ये नहीं होगी तब तक बार बार जन्म होता रहेगा और जब ये स्थिति आ जाएगी दोनों का स्वरूप अलग अलग ज्ञात हो गया तब चरिताधिकारा बुद्धि तब बुद्धि के ऊपर अधिकार समाप्त हो गया अब भोगों का दबाव खत्म हो गया जो सतुरज का जो दबाव था ना पैसे कमाओ खाओ पियो सोना चांदी खरीदो मकान बनाओ ये बंगला बनाओ इधर इन्वेस्टमेंट करो इधर प्रोडक्शन करो इधर री इन्वेस्टमेंट करो और पैसा कमाओ ये भोगों का दबाव था ये सारा दबाव खत्म हो गया चरिताधिकार अधिकार समाप्त हो गया निवृत्त अदर्शना उसके ऊपर से जो अदर्शन का अदर्शन था अविद्या हट गया मिथ्या ज्ञान हट गया उसको समझ में आ गया ये सब सोना चांदी यहीं रह जाएगा टाटा ने बिरला ने धीरू भाई अंबाणी ने बहुत पैसे कमाए कितने ले गया साथ में सब यही रहेगा तो उस व्यक्ति को जिसको ये समझ में आ गया कि सारी संपत्ति यही रह जाएगी जिसको समझ में आ गया वो इसके पीछे नहीं भागेगा तो गया छोड़ो नहीं चाहिए तो निवृत्त अदर्शना जिस बुद्धि पर से मिथ्या ज्ञान हट गया है बंध कारण अभावात वो जो बंधन का कारण था अविद्या वो हट जाने से न पुनरावर्तते वो फिर पुनर्जन्म में हमको नहीं लाएगी फिर अगला जन्म पैदा नहीं कर पाएगी अर्थात वो चित्त बुद्धि जो भी इंद्रिया अंतकरण आदि पदार्थ है ये फिर हमको अगले जन्म में नहीं बांध सकेंगे जब हमारा मिथ्या ज्ञान हट जाएगा यही तो बंधन का कारण था मिथ्या ज्ञान और वो हट गया तो अब बंधन नहीं होगा इस तरह से तस्य हेतु अविद्या बंधन का कारण संयोग का कारण अविद्या है इसलिए महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज का आठवां नियम बनाया अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ये काम करना चाहिए इसको कोई नहीं कर रहा बल्कि अविद्या को बढ़ा रहा है पैसे कमाओ डिग्रियां लो देश विदेश की यात्राएं करो घूमो फिरो पार्टियों में जाओ डांस करो इससे तो अविद्या बढ़ती है हमारे गुरु जी कहते हैं भोगों को भोगने से अविद्या बढ़ती है यदि आपके पास परीक्षण करने की दृष्टि नहीं है आप खा रहे हैं पी रहे हैं घूम रहे हैं देख रहे हैं सुन रहे हैं ठीक है इंद्रियों के विषयों का सेवन कर रहे हैं और आपके पास ये सब काम करते समय अगर परीक्षणात्मक दृष्टि नहीं है तो तो आप उसको सुख लेने की दृष्टि से ही भोगेंगे और इस दृष्टि से भोगेंगे तो अविद्या बढ़ेगी परीक्षण की दृष्टि से ही प्रयोग करना है वस्तुओं का सेवन इस दृष्टि से करना है कि चलो देखते हैं इसमें कितना सुख है कितनी देर टिकता है ये सुख क्या हमारी इच्छाओं को शांत कर पाता है कि नहीं कर पाता ये परीक्षण करने की दृष्टि से इन चीजों का भोग करें तो इस एंगल से देखें तो थोड़े दिनों में समझ में आ जाएगा कि सुख भोग लिया इच्छा तो काम नहीं हुई बढ़ती जा रही तृप्ति तो होती नहीं मन में और कुलगुलाट होती रहती है थोड़ा और भोग लू थोड़ा और भोग लो पर वो शरीर साथ नहीं देता इंद्रिया फेल हो जाती हैं और मन महसूस के रह जाता है आदमी इच्छाएं बेचारे की तक परेशान करती रहती हैं उसको ये परीक्षण उसका थोड़े दिनों में हो जाएगा अब एक और दूसरी बात ये तो बताया कि इस दृष्टि से विषयों का सेवन करें कि इसमें कितना सुख और कितना दुख ये जानना चाहते हैं अब एक व्यक्ति ये दृष्टि भी बाद में रखेगा वो खाली वस्तु उठा के मुंह में रखता है और इंद्रिया सन्निकर्ष होता है हलवा मिठाई खीर पूरी कोई भी चीज उसने मुंह में रखी बस वो जैसे ही सन्निकर्ष हुआ इतना ही बुद्धि घूम जाती है <laughs> इतना ही बुद्धि खराब हो जाती है और वो उसको सुख लेना शुरू कर देता है परीक्षण तो बाद में करेगा अभी वो बस मुंह में रखते ही बुद्धि घूम जाती है वो कहता है वाह आज तो हलवा बहुत टेस्टी बना आज तो खीर बहुत अच्छी बनी पिस्ता केसर बादाम ये वो सब इलायची सब बढ़िया डाल रखा है खूब गर्मा गर्म बढ़िया ताजी खीर है बहुत अच्छी है बड़ा मजा आ गया गुरु जी कहते हैं ये मुंह में रखते ही बुद्धि घूम जाती है और अविद्या को उत्पन्न करती है इसलिए बड़ी सावधानी से हमको मुंह में रखना है मिठाई ऐसे लापरवाही से मत रखना मुंह में रखते ही घूम जाएगी बड़ी सावधानी से खाना ये स्वाभाविक है इंद्रियों का जो विषयों के साथ संकर्ष होता है वो तुरंत अपना काम शुरू कर देती है और व्यक्ति को मूर्ख बना देती है फटाफट वो विद्या में फंस जाता इसलिए बहुत सावधानी से इन चीजों को खाना पीना और सभी इंद्रियों का प्रयोग करना चाहिए चलिए आगे पढ़ते हैं अत्र अत्र कश्चित कश्चित षंडकोपाख्यान षंडकोपाख्यान उद्घाटयति उद्घाटयति तो यहाँ पर कश्चित कोई व्यक्ति षंडक उपाख्यान से एक नपुंसक के दृष्टांत से उपाख्यान माने दृष्टांत कथा कहानी और षंडक कहते हैं नपुंसक को जो संतान उत्पत्ति करने में असमर्थ है ऐसा व्यक्ति तो एक षंडक के अर्थात नपुंसक के दृष्टांत से इस बात को उद्घाटयती थोड़ा और खोलता है और विषय को थोड़ा स्पष्ट करता है तो दृष्टांत यह है मुग्धया मुग्धया भार्यया भार्यया अभिधीयते अभिधीयते षण्डक षण्डक आर्यपुत्र आर्यपुत्र अपत्यवती अपत्यवती मे भगिनी मे भगिनी किमर्थम किमर्थम न अहम न अहम इति तो मुग्ध कहते हैं भोला भाला मुग्ध या भार्या एक भोली भाली स्त्री है पत्नी भार्या पत्नी तो एक भोली भाली स्त्री के द्वारा पत्नी के द्वारा ये बात कही जाती है अपने पति से वो अपने पति को कहती है हे शंडक हे नपुंसक पुरुष आर्यपुत्र मेरे हस्बैंड मेरे पति ये आर्यपुत्र जो है ना ये पति अर्थ में प्रयोग होता था आर्यपुत्र आपने रामायण महाभारत सीरियल देखे होंगे तो वहां भी आर्यपुत्र बोलते थे हम्म। तो पति को संबोधन करना हो हाँ तो आर्यपुत्र आजकल वो थोड़े शब्द बदल गए अब कहेंगे ए जी सुनते हो जी <laughs> इस तरह से बुलाते हैं मतलब पति की ओर संबोधन होता है तो पहले उस समय में आर्यपुत्र कहते थे तो हे आर्यपुत्र शंडक हे मेरे पति देव आप जो नपुंसक हैं उसको कहती है पत्नी के अपत्यवती में भगिनी मेरी बहन के तो संतान है, है? किमर्थम न हमेती मैं संतान वाली क्यों नहीं हूं ऐसा उसने कहा अपने पति से स, स ताम, ताम आ वो जो शंडक था नपुंसक व्यक्ति वो ताम अपनी पत्नी से कहता है जवाब में उत्तर में ये कहता है मृतस्ते मृतस्ते अहम अहम अपत्यम अपत्यम उत्पादयिष्यामी उपादयिष्यामी तो वो अपनी पत्नी से कहता है भाई मैं मरने के बाद तेरी संतान उत्पन्न करूंगा बहकाने <laughs> वाली बात तो इसलिए कहा उसने पत्नी बेचारी भोली भाली है वो गांव की है समझती नहीं पढ़ी लिखी है नहीं उसके मन में शंका उठी उसने पूछ ली भाई मेरी बहन को बच्चे हैं तो मेरे को क्यों नहीं है मेरे बच्चे क्यों नहीं है तो उसको बहकाने के लिए पति कहता है कोई बात नहीं जब मैं मर जाऊंगा ना तब तेरे संतान पैदा करूंगा तब तेरे बच्चे हो जाएंगे ऐसा वो जवाब देता है तो जैसे ये असंभव सी बात है जीते जी तो पैदा कर नहीं पाया मरने के बाद क्या करेगा तो इसी तरह से तथा इदम तथा इदम विद्यमान विद्यमान ज्ञानम ज्ञानम चित्त निवृत्तिम चित्त निवृत्तिम न करोति न करोति विनष्टम विनष्टम करिष्यति करिष्यति इति इति का का प्रत्याशा प्रत्याशा तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति ने जब ये बात उठाई कि जो विद्यमान पुरुष है पति वो जीते जी तो संतान उत्पत्ति कर नहीं पाया मरने के बाद क्या पैदा करेगा जैसे उसका कथन गलत है कि मरने के बाद संतान उत्पन्न करूंगा जैसे ये गलत है इसी तरह से ये कथन भी तो गलत है कि जो विवेक ख्याति है विद्यमानम ज्ञान जो विवेक ख्याति है विद्यमान ज्ञान है वो चित्त निवृत्ति अभी तो कर नहीं पा रहा और विनष्टम कर वो हट जाने के बाद वो चित्त की निवृत्ति कर देगा पुनर्जन्म को बंद कर देगा इसमें क्या आशा है क्या क्या उम्मीद रखे हम जीते जी तो वो चित्त का निवारण कर नहीं पा रहा जन्म मरण को रोक नहीं पा रहा और मरने के बाद वो क्या रोक पाएगा ये तो वैसी ही बात है बहकाने वाली बात है जैसे उस शंडक ने अपनी पत्नी को बहका दिया कि मरने के बाद संतान उत्पन्न करूंगा तो ये एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया अब ये प्रश्न क्यों उठाया इसलिए उठाया कि अपने इस योग शास्त्र में जो विवेक ख्याति है वो दो स्तर की है एक विवेक ख्याति है प्रारंभिक स्तर की जिसमें ईश्वर जीव और प्रकृति का सामान्य ज्ञान है है तीनों का ज्ञान सामान्य ज्ञान है तीनों चीजें अलग अलग हैं मोटे स्तर पर हमको समझ में आ रही हैं पर इस सामान्य ज्ञान से तो हमारा मोक्ष होगा नहीं वो ज्ञान थोड़ी देर के लिए होता है फिर गायब हो जाता है फिर छूट जाता है फिर थोड़ा सा ज्ञान होता है जब दुख आते हैं थोड़ा सा समझ में आता है हाँ संसार में दुख है हम गलत जगह फंस गए अगली बार नहीं फंसेंगे बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो फंस गए अगली बार नहीं फंसेंगे तो थोड़ा सा ज्ञान होता है तो दो चार दिन में दो चार महीने में फिर डाउन हो जाता है फिर स्तर गिर जाता है फिर दुनिया अच्छी लगने लगती है फिर सुख दिखने लगता है तो ये जो ज्ञान हुआ था जब ये ज्ञान विद्यमान है आज शास्त्र पढ़ लिया सत्संग में गए क्लास में गए बहुत सारा समझ में आया अब ये विद्यमान है ज्ञान ये तो हमारी मुक्ति करवा नहीं पा रहा और दो चार महीने में जब ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा तब मुक्ति करा देगा नहीं करा पाएगा तो फिर ये भी तो वैसी ही बात है कि मरने के बाद संतान उत्पत्ति करूंगा तो अब बताओ इसका क्या जवाब है ऐसा एक व्यक्ति ने आरोप लगाया सिद्धांति पर तो सिद्धांति इसका उत्तर देता है पत्र तत्र आचार्य देशियो आचार्य देशियो वक्ति वक्ति तो इस प्रश्न के उपस्थित होने पर एक आचार्य के स्तर का व्यक्ति ये इसका जवाब देता है व्यक्ति माने बोलता है कहता है इसका उत्तर देता है आचार्य देशीय जो लगभग आचार्य के स्तर का है उसके आसपास वो कहता है ननु ननु बुद्धि निवृत्ति रेव बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्ष मोक्ष अदर्शन अदर्शन कारण कारण अभावात अभावात बुद्धि निवृत्ति बुद्धि निवृत्ति तो वो आचार्य कहता है कि बुद्धि निवृत्ति रे मोक्ष ये बुद्धि हट जाएगी और बुद्धि के सारा साथ साथ सारा काफिला हट जाएगा पूरा ग्रुप हट जाएगा मन भी इंद्रिया भी शरीर भी सब छूट जाएगा जीवात्मा से अलग हो जाएगा इसी का नाम तो मोक्ष है बुद्धि आदि पदार्थ जीवात्मा से पृथक हो जाएंगे बार बार जन्म नहीं होगा बस इसी का नाम मोक्ष है और ये कैसे होगा बुद्धि निवृत्ति अर्थात इस सारे भौतिक पदार्थों का जीवात्मा से पीछा कैसे छूटेगा उसका कारण बताते हैं अदर्शन कारण अभावात बुद्धि निवृत्ति तो जो अदर्शन का कारण है अदर्शन रूपी कारण मिथ्या ज्ञान रूपी कारण उसके हट जाने से बुद्धि हट जाएगी क्योंकि वही तो इसका बंधन का कारण बनी हुई है अविद्या तो जब अविद्या हट जाएगी शरीर आदि बंद हो जाएंगे अगला जन्म बंद हो जाएगा ऐसा होगा बढ़िया तच्च तच्च अदर्शनम अदर्शनम बंद कारणम बंद कारण दर्शनात् दर्शनात् निवर्तते निवर्तते और ये जो अदर्शन है बंधन का जो कारण है अदर्शन मिथ्या ज्ञान ये किससे हटेगा दर्शनात् ये तत्व ज्ञान से हटेगा वही तत्व ही तो विवेक ख्याति तो विवेक ख्याति ही इसको हटा पाएगी इसलिए आप चिंता मत करो टेंशन में मत आओ भ्रांति में मत पड़ो कि ये तत्व ज्ञान जो है ये ये बंधन का निवारण कैसे करेगा मोक्ष कैसे कराएगा यही कराएगा अभी थोड़ा प्राइमरी स्तर का है नया नया है तो ये स्तर तो नहीं करा पाएगा पर ये जब विकसित होगा और डेवलप होगा तब तो ज्ञान ऊंचा हो जाएगा और गहरा ज्ञान हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा टिक जाएगा नहीं तो होता है ज्ञान छूट जाता फिर होता है फिर छूट जाता ये तो पूरा मोक्ष नहीं करा पाएगा लेकिन जब ये मजबूत हो जाएगा और टिक जाएगा स्थिर हो जाएगा तब यही तत्व ज्ञान अविद्या का नाश करेगा और मोक्ष प्राप्त करा देगा इसलिए हम जो कह रहे हैं वो षंडक उपाख्यान के तुल्य नहीं है षंडक तो मरने के बाद कर ही नहीं सकता पर ये जो प्रारंभिक स्तर है ये हट जाएगा ऊंचा स्तर आ जाएगा वो करा देगा पर ऊंचा स्तर का जो तत्व ज्ञान होगा उसका कारण ये प्रारंभिक ज्ञान इसलिए ये सर्वथा असमर्थ नहीं थोड़ा समय के पश्चात थोड़ा मजबूत होने के बाद ही कर डालेगा इसलिए हमारी बात को संडक के तुल्य मत समझो ऐसा उसने उत्तर दिया तत्र तत्र चित्त निवृत्तिर चित्त निवृत्तिर एव एव मोक्ष मोक्ष बस जब अविद्या हट जाएगी तत्व तो ज्ञान आकर के पक्का मजबूत हो जाएगा और अविद्या का नाश कर देगा तब ये चित्त और बुद्धि और ये सारी चीजें हट जाएंगी बस इसी का नाम तो मोक्ष है अगला जन्म नहीं हुआ आत्मा से शरीर छूट गया इंद्रिया हट गई मन हट गया बुद्धि हट गई सब चीजें अलग हो गई इसी का नाम मोक्ष है तो ये मोक्ष इसी तत्व ज्ञान से ही होगा आप भ्रांति में मत पड़ो हमारी बात को ठीक से समझो इस तरह से किमर्थम किमर्थम अस्थाने अस्थाने एव एव अस्य अस्य मति विभ्रम मति विभ्रम ये जो आक्षेप लगाने वाला था ना अस्य इस आक्षेप लगाने व्यक्ति लगाने वाले व्यक्ति की मति विभ्रम बुद्धि खराब क्यों हो रही है मति बुद्धि विभ्रम मानी भ्रांति इसको भ्रांति क्यों हो रही है इसका दिमाग क्यों खराब हो रहा है ये ढंग से क्यों नहीं समझता हमारी बात को खाम खा बिना कारण अस्थान है उचित अवसर जिसका नहीं है अनुचित अवसर पे इसकी बुद्धि क्यों खराब हो रही है बात को समझता क्यों नहीं अर्थात कहना ये चाहते हैं कि हमारी बात को ठीक से समझो भ्रांति में मत पड़ो गहराई से विचार करो आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा यही तत्व ज्ञान जो आज प्राइमरी लेवल का है कल ये पक्का होगा विकसित होगा मजबूत होगा आपने एक बार मिर्ची खाई टेस्ट के लिए और मुंह जल गया तो तत्व तो ज्ञान हो गया मिर्ची खतरनाक है खराब है अगली बार नहीं खाऊंगा कान पकड़ता हूं ठीक है तो आज तत्व तो ज्ञान हो गया पंद्रह दिन में एक महीने में भूल गए एक महीने बाद फिर वो मिर्ची वाले पकौड़े खाए और दूसरी बार फिर मुंह जल गया और फिर अकल आ गई कि नहीं नहीं तो गलती हो गई अब कान पकड़ता हूं अब नहीं खाऊंगा तो अब ये भी कच्चा ज्ञान तो एक महीने में वो छूट जाता है एक महीने बाद व्यक्ति फिर वही गलती करता है फिर अगले महीने फिर मार खाता है तो फिर कान पकड़ता है कि अगली बार नहीं करूंगा ऐसे ये प्रारंभिक स्तर का कच्चा ज्ञान आगे चल करके हर महीने गलतियां करते करते एक साल में दो साल में पांच साल में अच्छी तरह पक जाएगा जब अच्छी तरह पक जाएगा फिर वो पांच साल के बाद फिर मिर्ची नहीं खाएगा कहेगा बस भैया देख लिया <laughs> इसमें कितना दम है सब देख लिया इससे तो मुंह जलता है पेट जलता है अब नहीं खाऊंगा तो वो तत्व ज्ञान उससे उसका पीछा छुड़ा देगा मिर्ची वाले पकौड़ों से और ऐसे ही अविद्या हट जाएगी तत्व ज्ञान से और हमारा जन्म मरण से पीछा छूट जाएगा और मोक्ष हो जाएगा तो ये था चौबीसवा सूत्र तस्य हेतु अविद्या इस संयोग का कारण अविद्या है बार बार जन्म लेने का कारण अविद्या है तो अब सीधी मोटी भाषा में समझ लेते हैं जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक जन्म होता रहेगा लोग कहते हैं साहब मुक्ति कैसे होगी वो पूछ रहे थे कि हमें पता चल जाएगा हमारी मुक्ति हो जाएगी हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगी आपकी अविद्या घट रही है या बढ़ रही है आप पता लगा सकते अपना आत्मनिरीक्षण करो पता चलेगा अविद्या घट रही है या बढ़ रही है संसार में राग द्वेष घट रहा है या बढ़ रहा है अगर संसार में राग द्वेष घट रहा है तो समझो अविद्या घट रही अगर राग द्वेष बढ़ रहा है तो समझो अविद्या बढ़ रही अविद्या राग द्वेष यदि बढ़ रहा है तो समझो बार बार जन्म अभी चालू रहेगा अभी हटने वाला नहीं है और रागवेश कम हो रहा है अविद्या कम हो रही है तो समझो हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये अविद्या धीरे धीरे कम होती जाएगी और होते होते होते एक दिन खत्म हो जाएगी हमारा जन्म मरण बंद हो जाएगा मोक्ष हो जाएगा तो जब अविद्या पूरी खत्म हो जाएगी तो भी पता चलेगा कि अब अविद्या नष्ट हो गई एक व्यक्ति ने पूछा कैसे पता चलेगा मैंने कहा आपको भूख लगती है बोले हाँ तो आप खाना खाते हैं बोले हाँ मैंने कहा जब भूख लगती है तब पता चलता है भूख लग रही बोले हाँ फिर मैंने कहा जब खाना खाते हैं तब पता चल रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं बोले हाँ मैंने कहा चार रोटी की भूख थी और दो रोटी खा ली तो आपको पता लगता है कि भूख अब थोड़ी कम हो गई है फिर तीसरी भी खा ली तो पता लगता है कि अब और थोड़ी कम हो गई फिर चौथी रोटी भी खा ली तो पता चलता है कि अब भूख नहीं बची है अब और नहीं खानी चाहिए अब भूख नहीं बची अब और रोटी नहीं खानी चाहिए इस बात का पता चलता है बोले हाँ तो मैंने कहा जैसे आपको भूख का पता चलता है कि अब भूख लग रही है अब रोटी खा ली अब और नहीं खानी है ऐसे ही अविद्या का भी पता चलता है बोले वो कैसे पता चलता है मैंने कहा इच्छा से पता चलता है संसार का सुख भोगने की इच्छा है अपना परीक्षण करो आपको पता चलेगा इच्छा है कि नहीं है पता चलता है तो अगर इच्छा है संसार का सुख भोगने की तो समझो अविद्या है और वो इच्छा बढ़ रही है वो भी पता चलेगा इच्छा घट रही है वो भी पता चलेगा तो सब पता चल जाएगा और वो घटते घटते एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा अब कोई इच्छा नहीं है धन की इच्छा नहीं है सम्मान की इच्छा नहीं है चेला बनाने की इच्छा नहीं है देश विदेश यात्रा की कोई इच्छा नहीं है सारी इच्छाएं खत्म हो गई वो इच्छाएं खत्म हो गई आपको पता चलेगा यदि आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा तो जब पता चलेगा कि आपको कोई इच्छा नहीं तो बस समझ लेना आपकी अयोध्या नष्ट होगी और अयोध्या नष्ट होगी तो मोक्ष हो जाएगा ऐसे पता चल जाएगा सबको पता चलेगा ठीक है आगे चले सूत्र 25 बोलिए तद अभावात, तद अभावात इसकी भूमिका भी है हाँ है पीछे भूमिका हेयम दुखम हेयम दुखम हेय कारणम च हेय कारणम च संयोगाख्यम संयोगाख्यम सनिमित्तम सनिमित्तम उक्तम उक्तम तो प्रसंग शुरू हुआ था सोलहवें सूत्र से हेयम दुखम अनागतम आने वाला दुख हेय है आने वाले दुख से बचना चाहिए उससे बचो यहां से प्रसंग शुरू हुआ तो उसमें चार बातें बतानी थी पहली थी हेयम छोड़ने योग्य क्या है वो बता दिया दुख सोलहवें सूत्र में तो कहते हैं हे हम दुखम हे दुख है ये बता दिया हे कारणम च संयोगाख्यम इस दुख का कारण संयोग है ये सत्रहवें सूत्र में बता दिया दृष्टि दृश्यो संयोगो यह हेतु ये दुख का कारण है जो कि सत्रहवें सूत्र में बताया गया तो दो बात बता दी और सनियुक्तम उत्तम संयोग आख्यम कारणम सनिमित्तम कारण सहितम उत्तम संयोग का कारण क्या वो भी बता दिया अभी पिछले सूत्र में चौबीस में तस्य हेतु अविद्या तो संयोग का कारण अविद्या है यहां तक हम पहुंच गए इतनी बात बता दी अब आगे चलते हैं अतः परम अतः परम हानम हानम वक्तव्यम वक्तव्यम अतः परम इसके पश्चात इसके आगे अब क्या बताना चाहिए हानम तो चार में से तीसरी चीज अब बताएंगे हेय हेय हेतु हानम हानोपाय चार में से अब तीसरी चीज बताई जाएगी जिसका नाम है हानम तो हानम के लिए सूत्र 25 बोलिए तद अभाव तद अभाव संयोग अभावो संयोग अभावो हानम हानम तदृशे तदृशे कैवल्यम कैवल्यम हम्म, बहुत अच्छा हानम क्या है उसको बताते हैं सूत्रार्थ पहले कर देता हूं बस बाद में भाषी पढ़ते हैं तत् अभाव उसका अभाव हो जाने से लोग कहते हैं ना मोक्ष कब होगा हम्म। सुन लीजिए बढ़िया उत्तर सीधा स्पष्ट सूत्र में ही सीधा सीधा उत्तर है कि मोक्ष कब होगा कब तक जन्म मरण चलेगा कब जान छूटेगी इससे तो कहते हैं तद अभाव उसका अभाव हो जाने से हम्म। किसका अविद्या हाँ पिछले सूत्र में जिसकी चर्चा थी चौबीसवें सूत्र में थी अविद्या तस्य हेतु अविद्या उस अविद्या का अभाव हो जाने से अविद्या के हट जाने से अविद्या जब हट जाएगी पूरी अविद्या मर जाएगी तब संयोग अभाव बस संयोग बंद हो जाएगा संयोग ही तो जन्म था आत्मा और शरीर का संयोग यही तो था जन्म तो अविद्या के हटने से जन्म रुकेगा और जन्म रुक गया इसी का नाम हान है संयोग अभाव हान यही तो हान है इसी का नाम मोक्ष है आत्मा शरीर के साथ नहीं जुड़ा छूट गया छूट गया बस यही तो मोक्ष है तो ये कैसे होगा अविद्या के हट जाने से तो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए ये आठवां नियम बनाया स्वामी जयराम जी ने कि अविद्या का नाश करो बस यही काम है इंसान बनकर अगर किसी ने अविद्या का नाश नहीं किया तो समझो उसने कुछ नहीं कमाया उसका पूरा जीवन पानी में गया बेकार गया व्यर्थ खाया पिया भोगा बूढ़े होकर मर गए तो सारे पशु पक्षी करते इंसान ने भी उतना ही किया तो पशु और मनुष्य में क्या अंतर हुआ और पहले भी कितने लाखों जन्म ले चुके मनुष्य बन बनकर तब भी यही किया खाया पिया भोगा बूढ़े होके मर गए तो ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है समय का नाश है <clears throat> तो जिसने अविद्या का नाश नहीं किया उसने जीवन में कोई लाभ नहीं कमाया इतने अच्छे साधन दिए भगवान ने बुद्धि मन इंद्रिया माता पिता परिवार धन संपत्ति इतनी विद्या अच्छे अच्छे गुरुजन विद्वान दिए तो भी कोई लाभ नहीं उठाया और जिसने यह विद्या का नाश किया उसने समझो वसूल किया मनुष्य जीवन को वसूल किया उसका पूरा पूरा लाभ उठाया और वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा तो अविद्या का नाश करने से संयोग हट जाएगा जन्म बंद हो जाएगा इसी का नाम हान है इसी का नाम मोक्ष है तत् वो मोक्ष क्या है उसको और स्पष्ट करते हैं दृशे है कैवल्यम जो दृषि रूप जीवात्मा है दृष्टा उसका कैवल्य है केवल से भाव कैवल्यम केवल माने अकेला ओनली वन सब बंधनों से छूटकर अलग हो जाना ये अलग हो जाना इसका नाम है कैवल्य तो अभी शरीर के साथ बंधा है मन बुद्धि इंद्रियां धन संपत्ति परिवार सब चीजों से बंधा हुआ है तब इन सब चीजों से छूट के अलग हो जाएगा बस इसी का नाम मोक्ष ठीक है ये सूत्रार्थ हुआ भाष्य पढ़ेंगे तस्य अदर्शनस्य अदर्शनस्य अभावात् अभावात् बुद्धि पुरुष बुद्धि पुरुष संयोग अभाव संयोग अभाव आत्यंतिको आत्यंतिको बंधन बंधन उपरम उपरम इत्यर्थ ठीक है इसको रोक दी पंक्ति तो हमने पढ़ दी थी मैं इसका अर्थ सुनाता हूं तो लिखा है भाष्य में तस्य अदर्शन से उस अदर्शन का अभाव हो जाने से अदर्शन अविद्या मिथ्या ज्ञान तो उस मिथ्या ज्ञान के हट जाने से बुद्धि पुरुष संयोग अभाव बुद्धि यानी सारे प्राकृतिक पदार्थ बुद्धि मन इंद्रिया पूरा शरीर आ गया इन बुद्धि आदि पदार्थों का और पुरुष का जीवात्मा का संयोग अभाव ये संयोग हट जाएगा शरीर आदि पदार्थ और जीवात्मा दोनों अलग अलग हो जाएंगे ये संयोग समाप्त हो जाएगा और कैसा अभाव होगा आत्यंतिका बस हमेशा के लिए पूरी तरह से स्थूल शरीर से अभाव तो हर जन्म में होता है स्थूल शरीर से तो संयोग छूट ही जाता है मरने पर आत्मा इसको छोड़ के फिर अगले शरीर में चला जाता है तो इस स्थूल शरीर से तो छूटा पर ये थोड़ी देर के लिए छूटा और थोड़ी देर बाद फिर दूसरा मिल गया अगला जन्म हो गया ऐसे स्थूल शरीर से तो बार बार छूटता रहता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए छूटता है और फिर नया नया जन्म होता रहता है लेकिन अब जो छूटा अब ऐसा नहीं छूटा अब तो करोड़ों साल के लिए हमेशा के लिए हमेशा का मतलब उसका मुक्ति का पीरियड फिक्स है इतने लंबे समय के लिए उसका मोक्ष हो गया अब अगला जन्म बार बार नहीं होगा आत्यंतिक से यह अभिप्राय लेना चाहिए आत्यंतिक का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि बस अभी अनंत काल के लिए मुक्ति हो गई अब कभी लौट के आएगा ही नहीं ऐसा नहीं हम कभी मोटी भाषा में कह भी दें कि उसका हमेशा के लिए मोक्ष हो गया उसका अर्थ यही लगाना है कि लंबे समय के लिए परमानेंट मुक्ति हो गई परमानेंट का मतलब है लंबे समय के लिए एक व्यक्ति ने पूछा जी ये परमानेंट का अर्थ लंबे समय के लिए क्यों ऐसा अर्थ क्यों कह रहे हैं आप अनंत काल के लिए क्यों नहीं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा भाषा व्यवहार में प्रयोग चलता है कोई चीजें थोड़ी देर के लिए होती हैं कुछ चीजें लंबे समय के लिए होती हैं जो थोड़े समय के लिए होती हैं उसको हम टेम्परेरी कहते हैं एक व्यक्ति ने डिग्री ली ठीक है और एक कंपनी में उसने जॉब शुरू की वो टेम्परेरी छह महीने के लिए अभी वो उसका ट्रायल चलेगा क्या बोलते हैं प्रोवेशनरी प्रोवेशनरी पीरियड है ना अभी उसका परीक्षण चलेगा ये ठीक काम करता है नहीं करता है योग्यता कैसी है तो छह महीना उसका परीक्षण चलता है वो टेम्परेरी सर्विस है अगर वो परीक्षा में पास हो गया तो उसको परमानेंट सर्विस मानी जाएगी उसकी परमानेंट कर देंगे और अगर वो फेल हो गया परीक्षा में तो छुट्टी कर देंगे अब वो छह महीने की सर्विस है वो टेम्परेरी है और उसमें वो पास हो गया तो कंपनी के बॉस ने उसको लेटर दे दिया परमानेंट भाई अब चलो आप हमेशा के लिए हमारे यहां काम करो तब उसकी चालीस साल की सर्विस हो गई वो परमानेंट सर्विस है वो परमानेंट सर्विस है कितने साल की चालीस जब चालीस साल की चीज को आप परमानेंट कह सकते हैं तो हम अरबों वर्षों की मुक्ति को परमानेंट क्यों नहीं कहेंगे <laughs> ये तो उससे कितनी अधिक है ठीक है ना उस चालीस साल की सर्विस को भी हम परमानेंट शब्द से बोलते हैं तो उसका तात्पर्य क्या था कंपेरेटिवली परमानेंट तुलनात्मक दृष्टि से वो बहुत लंबे समय के लिए छह महीने की टेम्परेरी और चालीस साल की परमानेंट उसकी तुलना में लंबे समय की तो ऐसे ही जन्म होता है पचास साठ साल अस्सी साल सौ साल का तो इसकी तुलना में मुक्ति अरबों करबों खरबों वर्षों की है इसलिए वो परमानेंट होगी तो परमानेंट का यह अर्थ लगाना चाहिए तो कहा आत्यंतिक बंधन अभाव संयोग अभाव अब हमेशा के लिए उसका शरीर का संयोग छूट गया आत्मा और शरीर का और सब चीजों का बंधन उसका कट गया बंधन उपरमा बंधन समाप्त हो गया ये अभिप्राय है ये है मोक्ष हानम हानम बस इसी का नाम हान है ये हान शब्द ओहाक त्यागे इस धातु से बनता है त्याग करना अलग होना कट ऑफ तो जीवात्मा इन सब चीजों से कट ऑफ हो गया अलग हो गया बस यही हान है इसी का नाम मोक्ष है और वैसे मोक्ष को देखें तो मुच मुचिर मुंचिर धातु से है मतलब उसका अर्थ भी मुक्त होना छूटना अलग होना मुंच मुंच धातु से अलग होना उससे मुक्ति या मोक्ष शब्द बनता है उसका अर्थ यही है कट ऑफ होना अलग होना तो आत्मा इन शरीर आदि पदार्थों से अलग हो जाएगा ये हान है मोक्ष है अब ये मोक्ष क्या है इसको और एक सिक्के की सेकंड साइड बताते हैं सिक्के की दूसरी साइड बताते हैं तत् दृशे कैवल्यम दृशे कैवल्यम तत् वह जो मोक्ष है वो दृष्टा का कैवल्य है दृष्टा जीवात्मा ये सब चीजों से अलग हो गया अकेला हो गया केवल हो गया केवल से भाव कैवल्य अकेला हो जाना इसी का नाम कैवल्य है इसको और खोलते हैं पुरुषस्य पुरुषस्य अमिश्री भाव अमिश्री भाव पुनः पुनः असंयोगो असंयोगो गुण गुण इत्यर्थ इत्यर्थ ये इसका अर्थ है और खोला इन्होंने कैवल्यम का मतलब है पुरुष का अमिश्री भाव पुरुष दोबारा इसके साथ न जुड़े कनेक्ट न हो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ दोबारा कनेक्ट नहीं होगा पुनः असंयोग बार बार जन्म नहीं लेगा ये अभिप्राय है दुख कारण दुख कारण निवृत्तौ परमो दुखो परमो हानम हानम तदा तदा स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष पुरुष इत्युक्तम इत्युक्तम तो कहते हैं दुख का कारण हट जाने पर दुख उपरमा दुख का कारण निवृत्ति दुख का कारण था जन्म संयोग दृष्टि दृश्यो संयोग हेतु हे हेतु दुख का कारण क्या था संयोग संयोग हट गया जब कारण हट गया तो कार्य हट जाएगा तो संयोग हट जाने पर दुख उपरमा दुख आना बंद हो जाएगा क्या आप दुख से छूटना चाहते हैं हाँ। तो आपको ये करना पड़ेगा जन्म लेना बंद करो इसलिए मैं रोज सुनाता हूं लोगों को दुख से बचने का एक ही रास्ता है जन्म लेना बंद करो पर लोगों की समझ में नहीं आता <laughs> हाँ जी बोलिए आपने ये कहा कि मोक्ष अनंत काल के लिए नहीं है जी वो क्यों नहीं है इसलिए कि हम अनंत कर्म नहीं कर सकते मोक्ष जो है ये कर्मों का फल है यह मुफ्त में मिलेगा कर्मों का फल हम ये शास्त्रों को पढ़ेंगे इसको पढ़ पढ़ के अपने ज्ञान को शुद्ध करेंगे ज्ञान को शुद्ध करके अच्छे काम करेंगे निष्काम कर्म करेंगे समाधि लगाएंगे परोपकार समाज सेवा करेंगे इन इन सब कर्मों का फल है मोक्ष तो ये जो मोक्ष के लिए हम कर्म कर रहे हैं ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं समाज सेवा कर रहे हैं निष्काम कर्म कर रहे हैं समाधि लगा रहे हैं ये सारे कर्म लिमिटेड है सीमित है तो न्याय क्या कहता है सीमित कर्मों का फल सीमित होना चाहिए या असीमित सीमित तो मोक्ष के लिए कर्म की असीमित तो मोक्ष रूपी फल भी सीमित होगा इसलिए एक दिन उसकी सीमा आ जाएगी जितना फल पूरा भोग लिया तो मोक्ष का खत्म हो गया पीरियड चलो दोबारा वापस दुनिया में फिर जाओ संसार में फिर नए कर्म करो फिर मोक्ष में आ जाओ दूसरी बार करो दूसरी बार आ जाओ फिर लौट के वापिस आओ तीसरी बार फिर कर्म करो फिर आ जाओ मोक्ष का दरवाजा बंद नहीं होता है वो खुला ही रहता है आपकी इच्छा है आप जाओ या मत जाओ मुक्ति से लौट आए फिर नए कर्म करो फिर जाओ मोक्ष के आने के बाद फिर जीवात्मा अच्छे कर्म करने में प्रेरित रहता है या संसार में फंस जाता है सुबह बताया था ना जब लौटेगा तो जीरो पे चलेगा जीरो पे चलेगा जीरो से चलेगा फिर वो मर जाएगा वही फंस जाएगा ये सारे कुत्ते गधे भेड़ बकरी सुअर जो बने हुए ना ये सब मुक्ति से जो लौट कर आए वहां से लौट के आए जीरो पर आए शूद्र परिवार में वहां विद्या ने दबा लिया फिर झूठ छलकपट चोरी की और भगवान ने कुत्ता गधा बना दिया अब अपना दंड पूरा करके फिर लौट के मनुष्य बनेंगे फिर मनुष्य बनेंगे शूद्र बनेंगे फिर इनको अवसर मिलेगा फिर अच्छे काम करो अच्छे कर्मों की परसेंटेज बढ़ाओ फिर चलो मोक्ष की तरफ बस ये चक्कर चलता रहता है ये समझना जिसको ये समझ में आ जाएगा वो अच्छे काम करेगा मोक्ष की तरफ चलेगा बुरे काम नहीं करेगा कुत्ता गदा नहीं बनेगा पशु पक्षी नहीं बनेगा वो इस तरफ चलेगा और फिर भी अविद्या से पुराने संस्कारों से कुछ गड़बड़ कर भी डालेगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा फिर वापस चढ़ेगा जैसे सांप सीढ़ी का खेल होता है आपने देखा है ना सांप सीढ़ी का खेल यहां भी रखा है हाँ। देखो ये सांप सीढ़ी का खेल कर्म करने का स्वातंत्र कभी अच्छे काम करते हैं तो सीढ़ी लग जाती है ऊपर चढ़ जाता है फिर थोड़ा आगे चलते सांप काट लेता है नीचे आ जाता है तो सीढ़ी लगती है तो ऊपर चढ़ जाते हैं सांप काटता है तो नीचे आ जाते हैं तो व्यक्ति अच्छे काम करता है तो मोक्ष की तरफ बढ़ता है फिर बुरे काम करता है फिर नीचे आ जाता है पशु पक्षी बनता है तो ये जीवन ऐसे सांप सीढ़ी की तरह जिसको समझ में आएगा वो अच्छे काम करेगा मोक्ष में जाएगा नहीं आएगा समझ में घोटाले करेगा पशु पक्षी बनेगा जी तो मोक्ष का तो मोक्ष का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कम जन्म लेना मोक्ष का मतलब तो लेना ही है ना मोक्ष का मतलब जितने समय तक मोक्ष है उतने समय तक जन्म नहीं लेना वो है जन्म से छुटकारा वो है मोक्ष और जब उसका मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा फिर लौट के वापस दुनिया में आएंगे तो जितने समय तक मोक्ष बना रहा उतने समय तक आपको दुख नहीं आएगा ये फायदा है जब तक जन्म जन्म नहीं लेंगे तब तक दुख से बचे रहेंगे और दुख भी बचे रहेंगे दुख से और ईश्वर का आनंद भी मिलेगा हाँ। मोक्ष में कुल मिलाकर तीन बातें हैं तीन तीन बातें क्या करेगा हाँ तीन बातें हैं सुनिए पूरी तीन बातें आप भी बोलिए मेरे साथ पहली बात सारे दुखों से छूटना सारे दुखों से छूटना दूसरी बात ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना ईश्वर का उत्तम आनंद प्राप्त करना तीसरी बात पूरे ब्रह्मांड की सैर करना पूरे ब्रह्मांड की सैर करना ये तीन काम होते हैं मोक्ष में क्या आप सारे दुखों से छूटना चाहते हैं हाँ हाँ क्या आप ईश्वर का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं हाँ हाँ क्या आप ब्रह्मांड की सैर करना चाहते हैं हाँ इसका मतलब आप मोक्ष चाहते हैं चलो <laughs> चलो मोक्ष यहाँ क्या रखा है तो एक मिनट कितने समय तक मोक्ष का आनंद मिलेगा कितने समय तक दुखों से छूटे रहेंगे कितने समय तक ब्रह्मांड की सैर करेंगे वो टाइम पीरियड और सुनिए तब आपको समझ में आएगा मोक्ष क्या है उसका समय मेरे साथ बोलिए गणित जानते हैं मैथमेटिक्स कहां तक जानते हैं गिनती जितनी जानते हैं मैक्सिमम बताइए करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब आगे खरब आगे दस खरब आगे बस हमारे नहीं मालूम राजेश जी को मालूम सबको नहीं मालूम तो दस खरब के बाद अगला अंक है नील और उससे अगला है दस नील यदि कागज पर दस नील संख्या को लिखना हो तो पंद्रह अंक बनते हैं फिफ्टीन डिजिट्स एक लिख करके चौदह बार जीरो लगाइए ये हो गया दस नील अब इतनी लंबी संख्या में मोक्ष का समय है अब बोलिए इकतीस नील इकतीस नील दस खरब दस खरब चालीस अरब चालीस अरब वर्ष वर्ष इतना समय मुक्ति का है इकतीस नील दस खरब चालीस अरब वर्ष तक एक भी दुख नहीं आएगा और यहाँ तो रोज समस्या है दिन में चार बार झंझट है गैस खत्म हो गई टेलीफोन बिगड़ गया बच्चे ने शीशा तोड़ दिया उसको चोट लग गई वो बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल ले जाओ सारा दिन झंझट है यहाँ तो तो ये एक भी झंझट नहीं आएगा एक भी दुख नहीं आएगा कोई ना झूठा आरोप लगाएगा ना पत्थर मारेगा ना सांप फेंकेगा ना जहर खिलाएगा ना कोई परेशान करेगा एक भी दुख नहीं आएगा अरबों खरबों वर्षों तक और ईश्वर का आनंद लगातार मिलेगा इतने समय तक और जब जब ये ब्रह्मांड बनेगा तब तक इसकी सैर भी करते रहेंगे देखते रहेंगे अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या हो रहा है दिल्ली की संसद में क्या हो रहा है चलो देखते हैं और भोपाल में विधानसभा में क्या हो रहा है लोग कैसे माइक्रोफोन उखाड़ उखाड़ के मारते हैं एक दूसरे को जूते चप्पल फेंकते हैं वहां विधानसभा में फेंकते हैं ना वो सारा तमाशा देखने को मिलेगा ये है तो बताइए इतने समय तक व्यक्ति दुख से बचा रहे क्या ये छोटी बात है ईश्वर का आनंद लगातार मिलता रहे अरबों खरबों वर्षों तक क्या ये छोटी बात तीसरा रीजन क्यों है है पहला दो रीजन पहले दो कारण तो समझ में आते हैं हाँ? कि दुख नहीं मिलेगा और ईश्वर का आनंद हाँ, मिलेगा तीसरा करके क्या कर ब्रह्मांड की सैर करना उसकी क्या जरूरत है इसकी जरूरत यह है कि जब हम मोक्ष में जाएंगे आज भी और तब भी जो आत्मा है जीवात्मा क्या जीवात्मा ओमनिशियंट है क्या वो हर चीज जानता है जीवात्मा क्या सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ है आज भी अल्पज्ञ है थोड़ा ही जानता है और मोक्ष में जाएगा तब भी अल्पज्ञ रहेगा थोड़ा ही जानेगा अब जानने की इच्छा उसकी स्वाभाविक है मोटी चालू भाषा में कहे तो उसको बीमारी है <laughs> वो हमेशा कुछ ना कुछ जानना चाहता है उसको बीमारी है और स्वाभाविक बीमारी है जो भी चीज सामने आएगी देखेगा ये क्या है बच्चा बैठा है और वहां थोड़ा सा यूं शोर हो जाए नहीं हो फट देखता है क्या हुआ उसकी जानने की बीमारी है वो मतलब जानना चाहता है ये क्या हुआ थोड़ी भी ध्वनि होगी तो देखेगा क्या हुआ कोई चीज बच्चे के सामने ले आओ वो यूं आप फाड़ फाड़ के देखेगा ये क्या है कोई नया आदमी आएगा ना उसको यूं देखेगा तो वो ज्ञान की इच्छा उसकी स्वाभाविक है जब मोक्ष में जाएगा तब भी वो बनी रहेगी वो जानता ही नहीं सूर्य में परमाणु कैसे फूटते समुद्र में कैसी मछलियां होती कितने कितने कलर की कितने कितने डिजाइन की कैसे कैसे साइज की और कैसे जीती हैं कैसे खाती पीती हैं क्या करती हैं वो उसको नहीं मालूम तो वो ये सब जानकारी करने की उसकी इच्छा रहती है स्वाभाविक उस इच्छा को पूरा करने के लिए वो पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है वो देखता रहता है नई नई चीजें जानता है आप जानते हैं ब्रेड कैसे बनती है नहीं जानते और आपको कहा जाए चलो आज ब्रेड की फैक्ट्री दिखा के लाएंगे ब्रेड कैसे बनती है तो आप चलेंगे हम्म। देखेंगे आपको अच्छा लगेगा जानकारी बढ़ेगी आनंद आएगा बिस्किट कैसे बनते हैं ब्रेड कैसे बनती है कोल्ड ड्रिंक्स कैसे पैक की जाती हैं आप जाकर फैक्ट्री देखकर आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा तो ऐसे ही मुक्तात्मा की इच्छा होती है जानने की कि ये दुनिया कैसे चल रही है क्या हो रहा है देख कर आए इसलिए वो देखता है तो घूमता रहता है उसको अच्छा लगता है तो जो इंसान आज दुनिया में रह के जैसे आपने सुबह ही बताया कि समुद्र में कितने रंग की मछलियां सारे लोग ये यहाँ रह के भी जानते हैं हाँ, जानते इससे भी बहुत जानकारी मिलती है आनंद भी आता है हाँ। ये सब होता है लेकिन यहां बुखार भी आता है खांसी भी होती है टीबी होती है कैंसर होता है दुर्घटना होती है आंधी आती है तूफान आता है भूकंप आता है बाढ़ आती है बताओ इससे कैसे बचोगे आप मोक्ष में इन समस्याओं से छूट जाता है वहां आंधी आती रहे तूफान आता रहे बाढ़ आती रहे कुछ भी होता रहे उसको कोई कष्ट नहीं इसलिए कहा ना पहली चीज वहां सारे दुखों से छूट जाता है मोक्ष में ये फायदा है जानकारी तो अब भी कर सकते हैं और तब भी कर सकते हैं घूमने फिरने की छूट आज भी है और तब भी है लेकिन आज ये पचास तरह के दुख आते हैं इसका क्या करें ये नहीं भोगना चाहते हम यदि जन्म लेते हैं तो ये भोगना पड़ता है और मोक्ष में जाते हैं तो ये नहीं भोगना पड़ता अब दोनों बातें आपके सामने जैसा ठीक लगे वैसा करो जैसा अच्छा लगे वैसा करो यहां रहो या मोक्ष में रहो वहां के ये फायदे हैं कि दुख एक भी नहीं आएगा और सुख बढ़िया मिलेगा आनंद ईश्वर का जो आज नहीं मिल रहा है अभी आपको ईश्वर के सुख की क्वालिटी का पता नहीं है इसलिए आपको अभी मोक्ष में रुचि पैदा नहीं हो रही है जो गांव में रहते हैं बस्ती में गरीब बस्ती में रहते हैं उन्होंने कभी गुलाब जामुन खाए ही नहीं वो तो चने खाते हैं मिर्ची खाते हैं अचार खाते हैं उससे रोटी खाते हैं उनको क्या मालूम गुलाब जामुन का टेस्ट क्या है आपने टेस्ट किया है आपको पता है पर उनको नहीं पता उनको आप पूछो भाई गुलाब जामुन खाओगे तो कहें क्या होता है हमें तो पता नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए जिसने उसका टेस्ट नहीं लिया उसकी रुचि क्यों होगी तो अभी तक हमने ईश्वर का आनंद नहीं लिया इसलिए ईश्वर के आनंद में रुचि नहीं है अगर वो आनंद समझ में आ गया तब आप कहेंगे बस अब यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको हम कैसे समझें मोटे शब्दों में शब्दों से समझाना कठिन है फिर भी हम कोशिश करते हैं बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले पहले शब्दों से ही समझनी पड़ती है छोटे बच्चे को आप सिखाते हैं हाँ बेटा बोलो मैं डॉक्टर बनूंगा चार साल का बच्चा बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा उसको पता चला डॉक्टर क्या होता है उसको समझ में नहीं आया आपने रटवा दिया उसने रट लिया हाँ कोई भी घर में मेहमान आएगा वो आगे पूछेगा क्यों बेटा क्या बनोगे वो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा उसको नहीं पता डॉक्टर क्या होता है पर वो सीख लेता है रट लेता है और वो रटते रटते फिर स्कूल जाता है फिर पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते बीस पच्चीस साल मेहनत करता है वो डॉक्टर बन जाता है पर चार पांच साल की उम्र में उसको समझ में नहीं आया था डॉक्टर क्या होता है वो कहता मैं इंजीनियर बनूंगा उसको नहीं पता इंजीनियर क्या होता है पच्चीस साल बाद वो इंजीनियर बन जाता है ऐसे ही प्राइमरी लेवल पर हमको ये रटना होगा कि हम मोक्ष में जाएंगे पर मोक्ष क्या होता है अभी आपको पता नहीं चलेगा पर पहले पहले रटना है जब ये सारी तपस्या करेंगे साधना करेंगे धीरे धीरे समझ में आएगा तो शाब्दिक स्तर पर हम ईश्वर के आनंद को यूं समझ सकते हैं मोटे एग्जाम्पल से आपको सबसे अच्छी फेवरेट आइटम कौन सी लगती है खाने में टेस्टी जो आप बड़े शौक से खाते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी से मानस जी बोलिए फेवरेट आइटम फर्स्ट नंबर <laughs> बोलिए बोलिए कोई भी एग्जाम्पल दीजिए जो आपको अच्छी लगती है डोसा अच्छा लगता है गुलाब जामुन अच्छा लगता है रसगुल्ला अच्छा लगता है कोई भी नंबर फीकी दाल और भात बहुत पसंद है फीकी दाल और भात इसमें आपको बहुत अच्छा लगता है जो हाई लेवल टेस्ट का सुख का आप इस फीकी दाल और भात में समझते हैं इसको एक यूनिट मान लीजिए इतना आनंद एक यूनिट है अब जो ईश्वर का आनंद है वो इससे कई करोड़ यूनिट है इससे कई करोड़ गुना अधिक है वो ईश्वर का आनंद अगर आपको ये बताया जाए कि ईश्वर का आनंद ये दाल भात के आनंद से तो कई करोड़ गुना ऊंचा तो आपकी रुचि बनेगी या नहीं ईश्वर में बस मोक्ष में ये बढ़िया आनंद मिलता है जो आज नहीं मिल रहा समुद्र की मछलियां तो हम आज भी देख लेंगे पनडुब्बी में जाके या वो डीप स्विमिंग में जाकर के वो कपड़े पहन के चश्मा लगा के आज भी देख सकते हैं पर वहां शार्क ने हमला कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी <laughs> शार्क हमारे पीछे पड़ेगी तो जान बचाना कठिन होगा पर मोक्ष में ये समस्या नहीं वहां कोई मछली हमला नहीं करेगी उसको पता भी नहीं चलेगा हम यहां घूम रहे किसी को पता नहीं चलेगा हम दुनिया को देखेंगे दुनिया हमको नहीं देख सकती <laughs> कितनी मजेदार बात है तो बढ़िया आनंद मिलेगा एक भी दुख नहीं आएगा घूमने फिरने की पूरी छूट है इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए हम्म, बोलिए मैं वही जोड़ना चाहता था कि दो चीजें हमें पता नहीं है तो दुख रहित सुख क्या होता है हम्म। क्योंकि आज तक हमने भोगा नहीं उसे जी इसलिए जो दुख रहित सुख है ईश्वर का वो नहीं जानते जी और दूसरी जो उपनिषद की बात आपने जो कही कि एक मानुष सुख हाँ। और फिर वो देव सुख देव सुख और इतना करोड़ों आनंद मिलेगा वो नहीं मानो वो नहीं पता इसीलिए मोक्ष में रुचि नहीं हो रही हम मोक्ष को जानते नहीं जैसे वो बस्ती वाले गुलाब जामुन को जानते ही नहीं तो उनकी रुचि नहीं होगी वो तो अचार मिर्ची चटनी इतना ही जानते तो उनको बोलो चलो तुम्हें बढ़िया अचार आम का अचार और रोटी मिलेगी खाने में तो फटाफट दौड़े आएंगे गुलाब जामुन के नाम पर नहीं आएंगे वो जानते नहीं मोक्ष में सूर्य आदि का भी ज्ञान ले सकता है क्या आत्मा सूर्य का हाँ। बिल्कुल मोक्ष का मतलब है पूरी छूट ए टू जेड कहीं भी जाओ कोई रोक टोक नहीं सूर्य में जाओ पृथ्वी में जाओ तारों में जाओ एक गैलेक्सी में जाओ दूसरी में जाओ तीसरी में जाओ कहीं भी जाओ पूरी छूट है खूब घूमो फिरो देखो कोई कोई रोक टोक नहीं हुआ नो एंट्री का बोर्ड मोक्ष में नहीं होता <laughs> यहाँ होता है नो एंट्री इधर नहीं जाना इधर नहीं जाना ये वन वे ट्रैफिक है यहाँ पर प्रतिबंध होते हैं मोक्ष में कोई प्रतिबंध नहीं पूरी छूट खूब घूमो फिरो देखो सत्यार प्रकाश में लिखा हुआ है कि मतलब जीव सूर्य आदि जगह भी उपस्थित है तो शरीरधारी से मतलब था या फिर बिना शरीरधारी वो ये नहीं कहना चाहते सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है कि सूर्य आदि में भी मनुष्य आदि प्रजा रहती है नहीं ऐसा नहीं है वहाँ क्या लिखा है वहाँ लिखा है कि हम्म, जगत बनाया जगत बनाया हम्म, हम्म। तो वो जीव के बिना अधूरा है ठीक है तो किसी ने पूछा कि सूर्य में भी जीव है क्या तो उन्होंने कहा कि हाँ जीव तो हर जगह है क्योंकि प्रकृति मतलब जो भगवान का संसार है बिना जीव के से मतलब था उनका या जीव से आत्मा से उस चैप्टर को मैंने कम से कम पच्चीस तीस बार पढ़ा अच्छा। और पूरी सत्यान प्रकाश तो सौ बार पढ़ी अच्छा। तो मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा उसको आप भी फिर जाके पढ़िए उस प्रसंग में ये नहीं कहना चाहते कि सूर्य में भी प्राणी रहते हैं वो प्रसंग है वसुओं का वसु आठ वसु है उन आठ वसुओं में एक सूर्य भी है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र और नक्षत्र ये आठ वसु बताए तो पूछा कि वसु किसको कहते हैं उसकी दो व्याख्या की वहां पर किसी ब्राह्मण ग्रंथ का वचन दिया है और कहा कि वसु उसको कहते हैं एक तो जिसमें प्राणी बसते हैं जैसे पृथ्वी इसमें प्राणी बस रहे हैं मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब बसते हैं तो पृथ्वी एक वसु है दूसरा वस्तु उसको कहते हैं जो प्राणियों को बसाने में सहायक है जैसे सूर्य सूर्य हमको यहाँ पर जीवित रहने में सहायक है यदि सूर्य ना हो तो हम नहीं जी सकते अनाज नहीं होगा फसल नहीं होगी ठंड पड़ेगी बर्फ में सब मर जाएंगे जम करके तो जीना मुश्किल है तो सूर्य ऐसा वसु है जो हमको जीवित रखता है जो हमको यहाँ बसाने में सहयोग करता है और पृथ्वी ऐसा वसु है जिसमें प्राणी बसते हैं तो उस प्रसंग में ऐसे समझना चाहिए तो सूर्य में प्राणी रहते हैं ये नहीं कहना चाहते पृथ्वी में रहते हैं और सूर्य हमको बसाने में सहयोगी तो स्वामी जी ने आगे लिखा कि ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वज्ञ का कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता तो जब ये छोटा सा पृथ्वी लोक मनुष्य आदि प्राणी सृष्टि से भरा हुआ है तो इतने लोक लोकांतर जो बनाए ईश्वर ने क्या ये शून्य होंगे इनमें भी मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं तो वहां ये तात्पर्य निकालना है कि जैसे इस सौर मंडल में एक पृथ्वी पर प्राणी है अर्थ पे ठीक है इस पृथ्वी पे प्राणी है मंगल पर नहीं मिला बुध पर नहीं मिला शुक्र पे नहीं मिला शनि पे नहीं मिला बृहस्पति पे नहीं मिला न से कम से कम एक सौरमंडल में एक पृथ्वी पे तो है बाकी ग्रह उपग्रह इसको जीवित रखने में सहयोगी है इसका संतुलन बनाए रखते हैं और ऋतु में मौसम ये वो जो भी साइंस वाले आपको बता देंगे क्या क्या लाभ है इसके और सूर्य भी हमको जीवित रखने में सहयोग कर रहा है इसके बिना हम जी नहीं सकते तो स्वामी दयानंद जी ये कहना चाहते हैं जैसे एक सौर मंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं मनुष्य तो ये सारा सौर मंडल सार्थक है इसमें यूजलेस कुछ भी नहीं ऐसे ही प्रत्येक सौर मंडल में कम से कम एक पृथ्वी ऐसी अवश्य होनी चाहिए एक प्लेनेट ऐसा होना चाहिए जिसमें मनुष्य आदि प्राणी रहने चाहिए तब तो सौर मंडल बनाना यूजफुल है सार्थक है नहीं तो बेकार है क्यों है जब कोई रहता ही नहीं तो क्यों है आपके पूना की जनसंख्या कितनी है तेरह लाख है बीस लाख मान लो बीस लाख रफली मान लेते हैं एक मकान में एवरेज पांच आदमी रहते हैं बीस लाख लोगों के लिए कितने मकान चाहिए चार, लाख तो चार लाख मकानों की जरूरत है बीस लाख की जनता है चार लाख मकान तो रह सकती अब जब रहने वाले बीस लाख है और मकान चाहिए चार लाख और आप यहाँ मकान बनाओ चालीस लाख तो क्या ये समझदारी जब रहने वाले ही नहीं है तो फालतू मकान क्यों बनाएंगे जब आप थोड़ी सी अकल रखते हो और यूं सोचते हैं फालतू मकान क्यों बनाएंगे तो भगवान में अकल हमसे कम है क्या वो वो नहीं सोचेगा कि जब कोई आत्मा तो है नहीं तो लोग लोग अंदर क्यों बनाए वो तभी तो बनाएगा ना जब कोई रहने वाला है तो ये महर्षि दयानंद जी कहना चाहते हैं जैसे यहां इस पृथ्वी पर प्राणी रहते हैं और बाकी सौरमंडल के सदस्य इसको जीवित रखने में सहयोगी है ऐसे ही प्रत्येक सौर मंडल में कम से कम एक पृथ्वी पर प्राणी रहने चाहिए क्योंकि वो ईश्वर का बनाया हुआ हमारा बनाया नहीं मनुष्य तो फिर भी भूल कर सकता है गलती कर सकता है फालतू के काम कर सकता है पर ईश्वर तो नहीं कर सकता कम से कम और ये सारे सौर मंडल हमने नहीं बनाए ये ईश्वर ने बनाए इसलिए वहां प्राणी रहते हैं वो ये कहना चाहते हैं ये नहीं कहना चाहते सूर्य में भी रहते हैं ये नहीं कहना चाहते वहां रहेगा तो कैसे जिएगा इतने हाई टेम्परेचर में <laughs> क्या मतलब क्या खाएगा शरीर अलग हो सकते हैं या तो आत्मा के मतलब खाएगा उद्देश्य होगा खाएगा क्या फसल कहाँ से उगेगी किस चीज को खाएगा क्या बचेगा और कैसे वो नाला धोना करेगा क्या चीज करेगा सूर्य में पॉसिबल ही नहीं हमारी समझ में तो नहीं आया वहां पर जीना खाना उत्पादन करना जो यहाँ पृथ्वी पे चल रहा है पूरा लाइफ चल रही है ऐसी सूर्य में ऐसी जची नहीं हमारी समझ में नहीं आई जी मोक्ष सब अग्रसर होने के लिए बोलते हैं ईश्वर की कृपा चाहिए जी बिल्कुल चाहिए तो वो कृपा ईश्वर की कृपा उन लोगों पर होती है जो अपनी कृपा अपने ऊपर करते हैं गॉड हेल्प दोस्त टू हेल्प जो खुद मेहनत करते हैं ईश्वर उनकी सहायता करता है अब लोग बहानेबाजी करते हैं साहब भगवान की जब कृपा होगी तब हो जाएगी हमारे हाथ पर मारने से क्या ये बहानेबाजी ये पलायनवाद है आप मेहनत करोगे तो भगवान की कृपा तो बरस रही तो ईश्वर की कृपा हो जाएगी आप अपने ऊपर खुद कृपा करो आप इसको समझो कि मोक्ष में जाना है संसार में दुख है मोक्ष में सुख है बस सोचना शुरू कर दीजिए पढ़ते जाइए चिंतन मनन करते जाइए पुरुषार्थ शुरू कर दीजिए ईश्वर की कृपा होती जाएगी बिल्कुल होगी वो पहले से तैयार है कमी हमारी तरफ से हम मेहनत नहीं कर रहे वो तो तैयार है उसने तो बनाई दुनिया इसलिए कि तुम मोक्ष में जाओ अब हम ही नहीं जा रहे जो सुबुद्धि देता है उसी तरफ चलने की वो तब देगा जब आप मेहनत शुरू करेंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे वो नहीं देगा वो नियम का पक्का है बिल्कुल सौ परसेंट पक्का है एक परसेंट भी इधर उधर हिलता नहीं आप स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी करंट सप्लाई ठीक है ट्यूबलाइट ठीक है बिगड़ी हुई नहीं है स्विच ऑन करेंगे तो लाइट जलेगी सौ परसेंट जलेगी तो आप पुरुषार्थ करेंगे तो ईश्वर सौ परसेंट आपको प्रेरणा देगा सूद देगा वो जरूर हेल्प करेगा वो कभी कंजूसी नहीं करता जी बोलिए हाँ एक प्रश्न था कि अभी ऐसा करते हैं कि प्रलय हो गया है ठीक है ठीक है और उसके बाद दोबारा जीवात्मा आ जाएंगे तो जैसे इस पृथ्वी की शुरुआत हुई थी चार ऋषि जिनको ज्ञान लिया गया था जी। तो ये चार कैसे चुने गए थे उनके पूर्व जन्म के संस्कार से और नहीं तो फिर कैसे हम्म। तो इसका उत्तर है कि अब ये जो सृष्टि चल रही है इस सृष्टि के अंत में जब प्रलय होगी तो जितने भी जीव जीवात्मा है उनकी जैसी जैसी योग्यता है ज्ञान है गुणकर्म स्वभाव है वो जितनी जितनी योग्यता वो उतनी योग्यता लेकर के प्रलय में सो जाएंगे और जब नई सृष्टि बनाएगा ईश्वर इससे नेक्स्ट तो जितनी योग्यता जिसकी थी वो वहीं से उठा ले उठा देगा ईश्वर लो भाई तुम्हारा ये पिछला अकाउंट बैलेंस है ये तुम्हारी जेब में अब इससे आगे तुम आगे चलो फिर वही मोक्ष में जाना तो इस सृष्टि के अंत में जिन लोगों की जो जो योग्यता थी उनमें से मेरिट में चार आदमी ढूंढे जाएंगे मेरिट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होंगे वो चार ईश्वर छाट लेगा और इन्हीं कर्मों के पिछले कर्मों के आधार पर पिछली योग्यता के आधार पर ईश्वर उनको नई सृष्टि के आरंभ में चार वेदों का ज्ञान देगा इस आधार पर चुने जाएंगे ये कारण तो मोक्ष में जो ये है जीवात्माएं है आत्माएं हम्म, हम्म। उनका और इनके चार जो चुने जाएंगे उनसे कोई संबंध कोई संबंध नहीं वो मुक्ति से लौटे हुए चार आत्माएं नहीं है क्योंकि मुक्ति से जो लौटेगा वो तो शूद्र परिवार में जाएगा और ये तो सुपर फर्स्ट क्लास है जो <laughs> तो सबसे ऊंची योग्यता वाले ये तो मोक्ष में जाने के लिए किनारे पे तैयार बैठे इनको तो बस एक धक्का मारना है एक धक्का मारेंगे और गए मोक्ष में वो तो किनारे पर बैठे एंट्री के लिए लौटने वाले नहीं लौटने वाले तो मजदूर के घर जाएंगे देखिए अभी हम यहाँ पे दुख भोग रहे हैं जी ओके और हम जब मोक्ष आएंगे जी मतलब हम अभी प्राकृतिक चीजों को देख के दुख किए जी जी हम्म, हम भगवान के पास जाके उसका आनंद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे ठीक है तभी हम मोक्ष पर मोक्ष पर जाएंगे जी तो अभी ये ज्ञान मार्ग हुआ उसके बाद एक कर्म मार्ग है जी जी और एक भक्ति मार्ग है जी तो भक्ति मार्ग यहाँ तो सब बुद्धिजीवी बातें हो रही ठीक बात है अंतकरण के बारे में जब आदमी को जब समझेगा तभी वो जा पाएगा जी ठीक क्योंकि जब तक प्रेम की ज्वाला नहीं जलेगी नहीं जलेगी तब तक तब तक भक्ति से नहीं होगा बिल्कुल ठीक तो मेरा ऐसा मन कहता है कि हम्म। अगर मोक्ष मिलेगा आदमी को तो आदमी प्राकृतिक चीजें में सुख नहीं है तो उसको आत्मा को ऑलरेडी मालूम है ठीक है तो वो परमानंद में उसी टाइम में विलीन होके खुद को आनंद प्राप्ति भगवान के साथ ही पाएगा जी जी वो घूम के कुछ नहीं आनंद पा पाएगा हम्म, हम्म। मतलब मोक्ष के समय में हाँ, हाँ ठीक है क्यों पाएगा क्योंकि उसको तो ऑलरेडी मालूम है यस यहाँ पे मैं माइक चीजें ढूंढ के ऑलरेडी परेशान हूँ ठीक ठीक ठीक तो वो क्यों समंदर मछली और इस चीजों में घूम हाँ उसका उत्तर ये है कि मोक्ष में जो तीसरी बात थी ना ब्रह्मांड की सैर करना हम्म। आपका ऑब्जेक्शन उस पर है जब मुक्ति में चला गया आत्मा तो उसको आनंद तो मिल ही रहा है फिर क्यों गए इधर उसका जवाब यह है कि वो मोक्ष में आनंद तो ईश्वर का लेगा आई एग्री विद यू मैं बिल्कुल सहमत हूं आनंद तो ईश्वर का लेगा पर उसकी जानने की इच्छा फिर भी बची हुई वो जानना चाहता है कि मछलियां कैसी है समुद्र में कितने प्रकार की हैं कैसा उनका लाइफस्टाइल है कैसे खाती हैं कैसे पीती हैं कैसे संतान उत्पत्ति करती हैं कैसे जीवन जीती हैं बंदर कैसे जीता है चिड़िया कबूतर कैसे रहते हैं वो ये जानना चाहता है तो ये जानने के लिए जानने की इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड की सैर करेगा घूमता फिरेगा देखेगा सुनेगा सारे काम करेगा इसका आनंद नहीं लेगा आनंद तो ईश्वर का लेगा हाँ। और एक जीवात्मा की एक कोशिश जरूर रहेगी क्योंकि जब हम भगवान के बारे में अंतकरण से बातें करेंगे हम्म। क्योंकि हम लाइफ शब्दों में तो नहीं कह सकते जी। जब अंतकरण से वो जब निकलेगा हम्म। जब हम बातें करेंगे we will try to talk to him in our way ठीक है okay? ठीक है तो उस वक्त माइक सुख के बारे में तो हम वहाँ पे मांगेंगे मांगेंगे ही ठीक बात है राइट हम तो आध्यात्मिक सुख के बारे में ही मांगेंगे तो जी, भाई इससे अभी हमको निकालो और वहाँ पे हमें जाना है ठीक बात है इसी वक्त हम्म। अगर बुद्धि से हम जा रहे हैं हम्म। तो भक्ति की उत्पत्ति कैसे हो और कहा पे हो इसका उत्तर यह है कि हमारा जो ये योग दर्शन है सांख्य दर्शन है सारे दर्शन है वेद है उपनिषद है ये सारे शास्त्रियों कहते हैं पहले आप ये जानो कि संसार में दुख है पहली बात ये समझनी है जब संसार में दुख है ये समझ में आएगा तो आपको संसार से वैराग्य होगा इसमें जो आसक्ति है जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी ये ज्ञान मार्ग है ठीक है जब इतना ज्ञान मार्ग हमारा कुछ बनेगा ज्ञान थोड़ा बढ़ेगा और समझ में आएगा कि यह दुख है इससे छूटना चाहिए तब क्या करना फिर वेद और दर्शन शास्त्र ये कहते हैं तब ईश्वर के बारे में भी जानो कि ईश्वर में आनंद है संसार में दुख है ईश्वर में आनंद है ये दो चीजें जानो तीसरा अपने बारे में जानो कि मैं आत्मा हूं मेरे पास कोई सुख नहीं कोई आनंद नहीं मुझे तो आनंद की रिक्वायरमेंट है मुझे तो जरूरत है मुझे आनंद मिलना चाहिए दो ऑप्शन आपके सामने है एक संसार का सुख है एक ईश्वर का सुख है तो आपने जब दोनों को समझ लिया दोनों की तुलना कर दी कि प्रकृति का सुख तो घटिया है बहुत दुखदायी है ईश्वर का सुख सबसे बढ़िया है करोड़ों गुना ऊंचा है भौतिक सुख से और यही अच्छा है यही प्राप्त करना चाहिए ऐसा होने पर प्रकृति के अंदर जो रुचि है वो कम हो जाएगी ईश्वर में रुचि बढ़ेगी ये ज्ञान हो गया अब क्या करना आनंद मिलेगा ईश्वर से तो फिर ये शास्त्र कहता है कि अब ईश्वर के पास जाओ बैठो अब भक्ति करो बैठ के आंख बंद करो ईश्वर का ध्यान करो भगवान से प्रार्थना करो हे भगवान ये संसार समझ में आ गया यहां बहुत दुख है नहीं चाहिए बार बार जन्म नहीं चाहिए अब तो मोक्ष चाहिए अब आप कृपा करो हमको और जन्म मत दो और बार बार हमें ऐसा नहीं करना है बस अब तो मोक्ष चाहिए यहां से भक्ति शुरू हो जाएगी तो इस मार्ग में भक्ति को भी साथ जोड़ना है केवल ज्ञान से काम नहीं चलेगा बैठ करके उपासना भी करनी है मेडिटेशन करना है भगवान से प्रेयर करनी है प्रार्थना करनी जब हम प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर का जवाब आएगा वो कहेगा ठीक है आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष वाले काम करो तो क्या करें कि जाओ समाज सेवा करो जो तुमने समझा दूसरे को भी समझाओ जो तुमने सीखा दूसरे को भी सिखाओ इन लोगों की भी अविद्या दूर करो तो ये कर्म शुरू हो गया तो ईश्वर कहता तुम कर्म करो मोक्ष के लिए जाओ लोगों की अविद्या दूर करो तुम ये काम करो मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा तो यहां तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं पहले ज्ञान चाहिए और ज्ञान के आधार पर हम अपनी भक्ति शुरू करेंगे और फिर ईश्वर हमको कहेगा कर्म करो तो कर्म भी वैसे करने पड़ेंगे निष्काम भाव से मोक्ष प्राप्ति के लिए तो ज्ञान कर्म और उपासना तीनों का समन्वय करना पड़ेगा तीनों का कॉम्बिनेशन है तब मोक्ष मिलेगा एक से नहीं और अभी मान लो कि ज्ञान पाके हम इस वक्त मर गए ठीक है ओके ओके तो वो संस्कार हमारे ऊपर रहेंगे वो साथ में चलेंगे अगले जन्म में अगले जन्म जी तो अगले जन्म में हमें अच्छा जन्म मिलेगा जी ऐसा मानते जी जी तो, तो ये ज्ञान की जरूरत नहीं होगी ना कौन सी ये जो ज्ञान हमने अभी पाया है ये वाला हाँ तो वो सीधा उस वक्त भक्ति मार्ग में निकल जाएगा ये हमको संस्कार सहायता तो करेंगे किताब पढ़ने की फिर भी जरूरत पड़ेगी पर क्या होगा हमारी स्पीड बहुत तेज होगी स्पीड तेज होगी ये संस्कार हमको सहयोग करेंगे हेल्प करेंगे और इन इस चीजों को इन सारी चीजों को समझने की हमारी स्पीड बहुत फास्ट होगी जैसे एक आदमी आज साइंस पढ़ता है फिजिक्स पढ़ता है पढ़ाता भी है लेक्चरर बन गया प्रोफेसर बन गया एचओडी हो गया और director of the school of science भी हो गया ऊंची ऊंची पोस्ट प्राप्त कर ली बड़ा साइंटिस्ट हो गया और उसकी डेथ हो गई सारा जीवन उसने फिजिक्स पढ़ी पढ़ाई तो ये सारे फिजिक्स के संस्कार उसके साथ चले जाएंगे अगले जन्म में तो अगले जन्म में जाकर के उसकी ऑटोमेटिक रुचि फिजिक्स में होगी ये संस्कार उसको हेल्प करेंगे फिजिक्स पढ़ो बहुत अच्छी है उसमें मजा आता है उसमें अच्छा लगता है लेकिन उसको पढ़ना तो फिर एलकेजी से ही पड़ेगा ना हाँ लेकिन उसका कर्म होना चाहिए ना मनुष्य होने का हाँ वो भी है मान लिया उसके और भी अच्छे कर्म है जिससे उसको मनुष्य जन्म मिल गया और फिजिक्स के संस्कार भी चले गए साथ तो पढ़ना तो फिर भी उसको एलकेजी से ही पड़ेगा A B C D E F शुरू से फिर फिर पढ़ना पड़ेगा ये ठीक है कि उसकी स्पीड बहुत तेज होगी दूसरा विद्यार्थी उसी की क्लास में पढ़ने वाला वो फिजिक्स की एक बात को पांच बार में समझेगा पांच बार पढ़ाओ तब समझ आएगी इसको एक ही बार में समझ में आएगी तो इसकी स्पीड फास्ट होगी लेकिन पढ़ना शुरू से पड़ेगा एक्नोलॉजमेंट ज्यादा रहेगा हाँ जी तो ऐसे ही जो अध्यात्म विद्या पढ़ रहा है और इसके खूब संस्कार जमा कर लिए अच्छा सारा नॉलेज हो गया और डेथ हो गई तो अगले जन्म में इसको पढ़ना तो फिर से पड़ेगा उसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा एबीसीडी इसको भी पढ़नी पड़ेगी लेकिन स्पीड बहुत तेज होगी फास्ट होगी उसकी रुचि खाने पीने डांस करने में नहीं होगी उसकी रुचि अध्यात्म में होगी लोग कहेंगे चले यार आज पिक्चर देख रहे हैं वो कहेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं जाना मैं तो सत्संग में जा रहा हूँ तो बड़े अच्छे सन्यासी आए बड़ा अच्छा विद्वान है बड़ी ठीक समझे समझाते हैं बड़ा बढ़िया सुनाते सिखाते हैं मैं तो उन्हीं का लेक्चर सुनूंगा तुम जाओ पिक्चर देख रहा उसकी रुचि ऐसे हो और ये जो अंतकरण है हम्म। हम इसे हम हमारे एक्चुअली रेगुलर रूटीन के जो एक्टिविटीज है जी उसे एकदम नॉर्मल करके हम्म। हम अभी जो अभी कोशिश कर रहे हैं वी आर डूइंग हम उस बात पे है हम्म। तो ये अंतकरण शुद्धि करते वक्त जी ऐसे ऐसे होता है क्या कि भगवान इसी वक्त हम्म। मतलब ये चालू सिचुएशन में ही जी जी हमारे अंतकरण में दिव्य ज्ञान देता जाता है ऐसे नहीं देता वो नहीं देता ऐसे नहीं देता कोई अचानक कोई बल्ब जला दे नहीं ऐसे नहीं <laughs> ऐसा ऐसा नहीं मैं वैसे नहीं सोच रहा हाँ कि देखिए आपने जो अभी कहा कि हमें लास्ट में हमने जो पढ़ा था हम्म। तो हमारे साथ चले चलेगा ओके तो कुछ क्वेश्चन आपको तो हमेशा कोई नहीं पूछेगा हाँ, ऐसा नहीं कि उसको जानकारी नहीं है ठीक है ऐसा नहीं होता ठीक बात क्वेश्चन पूछेगा ही तो जानकारी मिलेगा ऐसे जरूरी नहीं है जी कुछ चीजें उसको ऑटोमेटिक एक्नोलॉज होती है तो मेरा ऐसा मन कहता है जी जी ये ये जो नॉलेज है जो हमने किताबों से या किसी से प्राप्त नहीं की जी जी अज्ञानी होगा जी कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा लेकिन उससे वो भगवत प्राप्ति के ज्ञान में नहीं होगा ऐसे नहीं होगा ठीक बात तो ये वही बात करो आप दूसरे शब्दों में इसी बात को कह रहे हैं कि वो जो अचानक उठेगा नॉलेज हाँ। वो कहाँ से आएगा वो पूर्व जन्म के संस्कारों से आएगा वो पहले पढ़कर आया उसी में से उठेगा कोई भी जो नॉलेज हमको उठेगा उसका कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए लाइट जलेगी तो कोई करंट सप्लाई तो होनी चाहिए ना बिना करंट सप्लाई के तो कोई लाइट जलेगा जलेगी नहीं चाहे तो आप एसी करंट से जलाओ चाहे आप डीसी करंट से जलाओ कोई ना कोई सोर्स तो चाहिए लाइट जलेगी तो आपने बैटरी इन्वर्टर लगा के वो जला देगा आपकी ट्यूबलाइट को कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए तो आपके अंदर जो ज्ञान उठेगा अंदर से उठेगा या तो वो पूर्व जन्म के स्टॉक में से उठेगा या फिर सामने से कोई गुरुजी सिखाएंगे कोई पढ़ाने वाला टीचर होगा वो आपको सिखाएगा तो दो में से कोई ना कोई एक सोर्स होना चाहिए ओके हम अभी इमीडिएटली इसके साथ सीधा कर्म फल के तौर पर कर्म जी अच्छे कर्मों का अच्छा फल बुरे कर्मों का बुरा फल ठीक जितना कर्म उतना फल पहले कर्म बाद में फल ग्यारह चीजें हम आगे जाएंगे <laughs> अच्छा। हम इसको थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि ये जो कर्म है हम्म। ये कहाँ पे नोट हो रहा है हाँ ईश्वर के पास नोट हो रहा है नोट हो रहा है मतलब मेरे मेरे अंतकरण में अभी जो चल रहा है वो नोट हो रहा है नोट हो रहा है बिल्कुल हो रहा है तो मेरा यही कहना है हम्म। कि मेरा जो अभी नोटिंग चल रहा है हम्म। कोई तो है मुझे मुझे बताने वाला या मेरे साथ चलने वाला जो नोटिंग कर रहा है वो ईश्वर है हाँ। वो आपके इस कर्म को नोट कर रहा है कर्म को नोट करना अलग चीज है और आपके अंदर से ज्ञान उठना अलग चीज है ओके लेकिन अभी मुझे वो भगवान न्यूट्रल तो नहीं रखेगा आप जितनी मेहनत करेंगे उतना उतना आपको तत्काल फल देता जाएगा न्यूट्रल नहीं रखेगा क्योंकि जीवात्मा पहले न्यूट्रल है न्यूट्रल न्यूट्रल तो वो होता ही नहीं कभी भी कुछ ना कुछ तो उसके स्टॉक में रहता ही है पूर्व जन्म से जो आया हाँ, देखिए हम तीन चीजें मानते हैं जी एक भगवान हाँ एक जीव हम्म। और एक माया ठीक है ओके प्राकृतिक ठीक है ठीक है तो माया तो जगत उसी का रूप है ना, ना, ना, बनाया भगवान नहीं है गड़बड़ है गड़बड़ है बनाया ईश्वर ने है हाँ। पर ये ईश्वर से अलग है ईश्वर का रूप नहीं मिक्स नहीं कर रहा हाँ। अलग अलग ओके मतलब हाँ, ओके अलग अलग ग्लास में तीन चीजें एक ब्लू और एक ब्लैक राइट अलग अलग मेरे सामने ठीक है ठीक है जो प्राकृति है वो भगवान नहीं बनाया बनाया वो बनाया किस लिए दो कारण एक तो हमारे पिछले कर्मों का फल देने के लिए पिछले जो हमारे कर्म बचे हुए थे स्टॉक में हाँ उन जीवात्माओं के कर्मों का बचे हुए कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि बनाई दूसरा इसलिए बनाए कि पिछले कर्मों का फल भोग लो आगे नए अच्छे कर्म करो यही विद्या पढ़ो समाज सेवा करो कुछ काम कर्म करो और समाधि लगाओ और ये सब करके मोक्ष में जाओ तो मोक्ष प्राप्ति पर्पज है इस दृष्टि को बनाने का ये दूसरा पर्पज है इसलिए बनाए अब जिसको ये समझ में आएगा वो क्या करेगा पिछले कर्मों का फल तो भोग ही रहा है शरीर मिल गया अब भी नए कर्म कर रहा है खा रहा पी रहा पैसे कमा रहा है सारा काम कर रहा है तो पिछले कर्मों का फल भी भोग रहा है और अब ये विद्या पढ़ करके वो समाज सेवादी अच्छे अच्छे काम करके तो वो आगे मोक्ष में चला जाएगा जिसको समझ में आएगा वो मोक्ष में जाएगा जिसको नहीं आएगा समझ में वो अपना स्कूल जाएगा डिग्री लेगा पैसे कमाएगा खाए पिएगा बूढ़ा होकर मर जाएगा फिर अगला दिन उसका चक्कर चलता रहेगा ओके जी हम एक नॉर्मल यूज करते वर्ड की if you want to know God just turn just turn around yes, आप, yes, आपको हाँ, सिर्फ घुमाओ हाँ उल्टा घुमाओ ओके यस तो मतलब ये ये पंच महाभूत हमारे सामने है जी और हम यहाँ पे है ठीक है और हम अभी इसका ऐसा मतलब हो कि भगवान हमारे पीछे खड़ा है और हम उसको पीट करके राइट राइट राइट हमको सिर्फ टर्न होना है टर्न होना बस तो ये जो है पंचमहाभूत ये माया जो है यहाँ पे खड़ी हुई जी जी तो ये चैलेंज है ना इन्होंने रखा हुआ यस यस चैलेंज है ओके ये परीक्षा है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है वो कह रहा है देखो बढ़िया बढ़िया आकर्षण जो फंसेगा वो दंड भोगेगा जो इससे बच जाएगा वो मेरा मजा लेगा मेरे पास आनंद तो लेगा उस टर्न में जी आ, इस सब चीजों की जरूरत ज्ञान के लिए रहेगी सिर्फ उसको जानने के लिए कि टर्न कैसे हो हाँ इसके ऊपर मात करनी की यस यस यस टर्न कैसे ले उसके लिए ये सहायता करेगा जी हाँ इसीलिए हम शास्त्र पढ़ते हैं ये तो, समझ में आएगा तो, तो टर्न मारे अंतकरण के भक्ति के वक्त जो हम कहते हैं कि बुद्धि का समर्पण करो ओके हम्म। हम्म। तो ये जानने के बाद करो ये जानने के बाद ही हो पाएगा जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप टर्न नहीं लेंगे ओके टर्न का टर्न लेने का रीजन यही है नॉलेज एक एग्जाम्पल से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी यहां पर मैं एक दूध का गिलास रख देता हूं भर के अभी अभी ताजा ताजा गरम गरम बढ़िया मलाई मार के इलायची केसर डाल के बढ़िया दूध गरम गरम यहाँ रख देता हूँ और आपको ऑफर करता हूँ भाई बहुत बढ़िया गरम गरम दूध है आप पी लीजिए बहुत अच्छा लगेगा आपको आनंद आएगा तो आपको भी देखने में आएगा कि हाँ भाई अच्छा अच्छा गरम गरम दूध है इलायची है मलाई है केसर है सब कुछ है शक्कर भी डली है बढ़िया टेस्टी दूध है इसका लाभ लेना चाहिए अगर आपका नॉलेज ये कहता है कि ये सुखदायक है लाभदायक है आपका ये नॉलेज कहता है तो आप उसको पियेंगे और जैसे ही आप पीने लगेंगे तो मैं कहूंगा ठहरिए पीने से पहले एक सूचना सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है उसको सुनने के बाद फिर आपकी इच्छा है पियो मत पियो आप जानो पर पहले पहले सूचना देना मेरा फर्ज बनता है मैं आपको ये सूचना दे रहा हूं इस दूध में थोड़ा सा पोटेशियम साइनाइड है सूचना समाप्त हुई अब आपकी इच्छा है अब आप पी सकते हैं अब आपका नॉलेज चेंज हो गया अरे इसमें पोटेशियम साइनाइड ये तो मार डालेगा अब आप टर्न मारेंगे नहीं मुझे नहीं चाहिए नहीं पीना अपना दूध अपने पास रखो मुझे नहीं पीना देखिए दूध से यू टर्न मार लिया ना ये क्यों मारा आपने जब आपको नॉलेज हुआ जब आपको ज्ञान हुआ कि ये दुख आएगा मार डालेगा तुरंत आपने टर्न लिया बस ये संसार भी ऐसा ही है जब तक ये गरम गरम इलायची केसर वाला मलाई वाला दूध दिखता है तो लोग इसको पकड़ते हैं संसार में पड़ते हैं भागते हैं पैसे कमाते हैं खाते पीते हैं सुख लेते हैं और जब ये पता चलता है कि इसमें पोटेशियम साइनाइड है इसमें आंधी तूफान बाढ़ भूकंप गर्मी ठंडी सर्दी जुकाम बुखार लड़ाई झगड़ा विश्वासघात धोखाबाजी एक्सीडेंट हाथ पांव टूटना ये सब झंझट है जब ये समझ में आता है तो वो टर्न मारता नहीं भैया नहीं चाहिए अपने वापस चलो मोक्ष में चलो वहीं वहीं इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा वहीं जाएंगे तो ये नॉलेज पर खड़ा हुआ इसलिए ज्ञान को सबसे मुख्य आधार बताया इन सारे शास्त्रों ने सांख्य में कहा तो है ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से ही मोक्ष होता है और यहां भी यही कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान से ये मिथ्या ज्ञान हटेगा और ये हटेगा मिथ्या ज्ञान और जन्म होना बंद हो जाएगा इसी का नाम मोक्ष तो ये काम करना है ज्ञान ही मुख्य आधार है उसको पकड़ना उसके लिए हम पुस्तक पढ़ते हैं और एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है चिंतन मनन विचार ये लंबे समय तक करते हैं सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि लंबे समय तक ये पढ़ना सुनना चिंतन मनन विचार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं तो धीरे धीरे मजबूती आती है तत्व ज्ञान पक्का होता है जब वो तत्व ज्ञान पक्का होता है तब जाके मोक्ष की स्थिति बनती है ये है चौथी बात हानोपाया जो कि अगले सूत्र में कहेगी क्लियर चलिए आज यही विराम देते हैं अगली चर्चा कल करेंगे वो पंक्ति पूरी कर दो दो शब्द रह गए थे दुख कारण निवृत्त दुख हो परमो हाना जब दुख का कारण हट जाएगा तो दुख अपने आप रुक जाएगा कारण हट गया तो कार्य हट जाएगा जन्म बंद हो गया दुख आना बंद हो जाएगा इसी का नाम हानम है मोक्ष है तदा तब स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुष प्रतिष्ठा पुरुष इत्युक्तम तब उस समय जब ये जन्म मरण बंद हो जाएगा दुख आना खत्म हो जाएगा छूट जाएगा तब क्या कहा जाएगा पुरुष जो जीवात्मा है स्वरूप प्रतिष्ठा अब वो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गया सब बंधनों से छूट गया अलग हो गया अकेला हो गया और अपने स्वरूप को ठीक से जानता है मैं आत्मा हूं शुद्ध स्वरूप हूं प्रकृति बेकार है दुखदायक है इसको छोड़ो और ईश्वर का आनंद लो इस तरह से उसकी स्थिति मोक्ष में रहेगी तो अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहेगा ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहेगा ईश्वर का आनंद लेगा और पूरे ब्रह्मांड की सैर करेगा यह मुक्ति का स्वरूप ठीक है जी एक बार ओम बोलेंगे लंबे स्वर से ओम सर्वेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः सबको सादर नमस्ते जी सबको सादर नमस्ते जी आपस में भी एक दूसरे को नमस्ते कर लेंगे